सबका भी आभारी हूँ क्या मेरे जैसे कम ज्ञान वाले व्यक्ति को सुनने के लिए इतनी संख्या में आए मैं क्या कह पाऊंगा ये थोड़ी देर में शायद तय हो जाएगा लेकिन पिछले चार पांच दिनों से मैं बहुत दुखी हूं और मेरा दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में एक तरफ तो आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जिन्होंने हमको गुलाम बनाया ये मेरे दिल का बहुत बड़ा दुख है पिछले पांच छह दिन से अखबारों में एक ही चर्चा है ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की यात्रा पर और ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की यात्रा पर है वो ऐसे ही नहीं आई हैं उनको बुलाया गया हमारी सरकार ने बाकायदा ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में बुलाया है और वो भी आजादी की पचासवीं सालगिरह पर जिनके कारण ये देश गुलाम हुआ जिनके कारण दो सौ ढाई सौ साल हम बहुत ही बदनामी का जीवन जीते रहे जिन्होंने भारतीय समाज को ऊपर से नीचे तक हर हिस्से में तोड़ दिया जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया जिन्होंने भारतीय खेती को बर्बाद कर दिया जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति का नाश किया जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए सारी ताकत लगाई और जिन्होंने भारतीय लोगों को ईसाई बनाने के लिए सारी ताकत लगाकर अपने मिशन भेजे उन लोगों का इस देश में आजादी के पचासवें साल में स्वागत होना मेरे जैसे नौजवान के दिल में बहुत गहरी चोट डालता तो पंचम आया था इंग्लैंड का राजा माना जाता तो 1911 में अगर जॉर्ज पंचम आया तो वो बात मेरे समझ में आती है क्यों क्योंकि 1911 में ये देश अंग्रेजों का गुलाम था 1911 में इस देश में अंग्रेजों का शासन चलता था 1911 में इस देश में अंग्रेजों की सरकार चलती 1911 में अंग्रेजों के कानून चलते थे उनकी व्यवस्था चलती तो अंग्रेजों का ही शासन था और अंग्रेजों की ही सरकार थी तो अंग्रेजों की सरकार ने अपने राजा को इस देश में निमंत्रित किया जिसका नाम था जॉर्ज पंचम और वो आया था इस देश में हालांकि उस समय भी इस देश के जो क्रांतिकारी लोग थे 1911 में महात्मा गांधी इस देश में नहीं थे लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे इसका मतलब ये नहीं था कि देश में क्रांति की आग नहीं जल रही उस जमाने में देश में दूसरे बड़े नेता थे जो क्रांति की आग को जला रहे थे लाला लाजपत राय थे पंजाब में तिलक साहब थे महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल थे बंगाल में और ऐसे तमाम दूसरे बड़े नेता थे सारे देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बगावत को लेकर चल रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉर्ज पंचम का विरोध किया था जॉर्ज पंचम को बहुत आसानी से हिंदुस्तान में आने दिया गया ऐसा नहीं था जॉर्ज पंचम का बहुत विरोध हुआ था और सारा देश दो हिस्सों में बट गया एक तरफ ऐसे लोग थे जो जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे और जो लोग जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे वो वो लोग थे जो मानते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान का भला करने के लिए आए ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आई और अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आए हैं इसलिए जॉर्ज पंचम का इस देश में आना बहुत शुभ है ऐसा मानने वाले बहुत बुद्धिजीवी थे लेकिन दूसरी तरफ एक और धारा थी जो राष्ट्रवादी धारा थी ये वो धारा थी जो जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे साम्राज्यवादी धारा माने अंग्रेजों के जो दोस्त थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे अंग्रेजी सरकार से जिनको इनाम मिलता था अंग्रेजों की सरकार जिनको राय बहादुर बनाती थी वो सारे के सारे लोग जॉर्ज पंचम के समर्थन में खड़े थे लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग भी थे जिनके लिए राष्ट्र सबसे पहले था भारतीय संस्कृति सबसे पहले थी उनकी अपनी जान उनका अपना स्वार्थ कुछ भी सामने नहीं था सिर्फ एक राष्ट्र देश संस्कृति इस देश की अस्मिता ये सब प्रश्न और ये सब मूल्य उनके सामने थे तो ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वालों में तिलक साहब थे बाल गंगाधर तिलक थे लाला लाजपत राय थे विपिन चंद्र पाल थे बंगाल की एक पूरी नौजवान पीढ़ी थी आनंद मठ के आंदोलन में से निकली हुई पूरी नौजवान पीढ़ी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज में से निकली हुई पूरी पूरी एक नौजवान पीढ़ी थी ऐसे तमाम लोग थे हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में जो जॉर्ज पंचम के विरोध में खड़े थे और ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो जॉर्ज पंचम के समर्थन में खड़े थे उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में से एक खानदान था जिसका नाम था टैगोर खानदान और उस टैगोर खानदान में एक व्यक्ति थे उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने तो अंग्रेजों के चरण धोने में अंग्रेजों के थूके चाटने को हिंदुस्तान में गौरव का प्रतीक बना दिया जो जॉर्ज पंचम इस देश की गुलामी का प्रतीक था जो जॉर्ज पंचम इस देश की साम्राज्यवादी शक्तियों का एक कठपुतली था एक नमूना था उस जॉर्ज पंचम के स्वागत में टैगोर साहब ने खुद एक बड़े से बड़ा गीत लिख डाला और जॉर्ज पंचम का स्वागत जब हुआ कलकत्ता में तो उस कलकत्ता में टैगोर साहब ने खुद अपने मुंह से वो गीत गाया जो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था ये घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो महारानी के समर्थन में जो विदेशी कंपनियों के समर्थन में जो मानते हैं कि फिर से इस देश में गुलामी आ जाए तो ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसे लोग उस जमाने में भी थे उन्नीस सौ ग्यारह में और उन लोगों ने तो अपनी गुलामी की इंतहा की थी जब जनगणमन अधिनायक जय लिखा यह गीत क्यों लिखा गया था यह गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था और जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखे हुए गीत का मतलब आप जानते हैं क्या है आप में से बहुत कम लोगों ने गंभीरता से सोचा होगा कि ये गीत जो पिछले कई सालों से हम गाते चले आ रहे हैं जनगणमन नायक जय इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखा गया 1911 में ब्रिटेन के राजा के स्वागत करने के लिए ये गीत लिखा गया था और इसका मतलब क्या है मन अधिनायक जय है माने हिंदुस्तान की जनता के मन के अधिनायक माने ब्रिटेन के राजा तुम्हारी जय हो जय किसकी बोली जा रही है हिंदुस्तान की जनता की नहीं ब्रिटेन के राजा तुम्हारी जय हो क्योंकि तुम हिंदुस्तान की जनता के मन के गणों के अधिनायक हो तुम्हारी जय हो जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता तुम भारत के भाग्य विधाता हो गुलामी की चरम सीमा है ये जब टैगोर ने अपनी लेखनी का इस्तेमाल किया बहुत सारे लोग अपनी लेखनी का दुरुपयोग करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं वैसे ही एक लोग थे टैगोर खानदान के जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई तो हिंदुस्तान के उस व्यक्ति के लिए जिसका इस देश में स्वागत नहीं होना चाहिए था जिसको इस देश में नहीं आना चाहिए था उसके लिए गीत लिखने के लिए उन्होंने लेखनी चलाई तो जनता के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो तुम भारत के भाग्य विधाता हो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना जंग गंगा उच्छल जलद तिरंग माने ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग ये हिंदुस्तान के तमाम इलाके हैं ये सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं मन अधिनायक जय भारत माँ के विधाता की लाइन को रिपीट करते हुए जय है जय है जय है माने हम सब उन्हीं के गान में जय जय करते चले जाए ये गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर और इस गीत को सुनाया था उन्होंने उस व्यक्ति के सामने जो हिंदुस्तान की गुलामी का प्रतीक था और उसके स्वागत में उन्होंने ये गीत गाया था उसी गीत की प्रशंसा के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल प्राइज मिल गया था क्योंकि अंग्रेजों की चाटुकारिता जो उन्होंने की और अंग्रेजी सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि के लिए उन्होंने जो अपना दिल बिछा दिया और हिंदुस्तान की गुलामी के सरताज को उन्होंने इस देश में आवकारने का जो काम किया उसके बदले में इनाम मिला कि उनको राय बहादुरी मिली और राय बहादुरी के बाद नोबल प्राइज भी मिला क्यों मिल गया ऐसे ही नहीं मिलता अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले अंग्रेजों को इस देश में आवकारने वाले अंग्रेजों का सम्मान करने वाले उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के उन तमाम शहीदों को हिंदुस्तान के उन तमाम वीरों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने सर्वस्व कुर्बान किए थे एक झटके से फेंक कर उस अंग्रेज किंग का उस अंग्रेज राजा का इस देश में अद्भुत तरीके से स्वागत किया गया और अभी चार दिन पहले वही गीत गाकर ब्रिटेन की महारानी को उस दिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया उन्नीस सौ ग्यारह में यह देश गुलाम था अंग्रेजों का तो बात समझ में आती है कि चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए वो करना हमारी मजबूरी रही होगी लेकिन आज तो यह देश आजाद है और आजादी के पचास साल की स्वर्ण जयंती मना रहा है तो आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती में ऐसे लोगों को बुलाने का और ऐसे लोगों के सम्मान करने का काम था काम जिन्होंने इस देश को 250 साल गुलाम बनाया और बहुत बेशर्मी के साथ आज भी ये देश दो हिस्सों में बट गया है बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो रानी के समर्थन में खड़े अपनी कलम और अपनी लेखनी का वैसा ही दुरुपयोग कर रहे हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था बहुत जो ब्रिटेन की कंपनियों के समर्थन में खड़े जैसे उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में खड़े होते थे लोग और बहुत सारे लोग हैं जो मानते थे कि अंग्रेज इस देश का भला करने के लिए आए हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी देश का विकास करने के लिए आई है ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि महारानी इस देश का भला करने के लिए आई है इसलिए महारानी को बुलाया गया मेरे जैसे आदमी के लिए मेरे जैसे राष्ट्रवादी के लिए ये हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती नहीं है हिंदुस्तान के लोगों को गुलामी का समय याद दिलाने की कोशिश है महारानी को हिंदुस्तान में बुलाने और वो महारानी हिंदुस्तान आई तो उसके कुछ दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री श्री इंदू कुमार गुजराल ने एक वक्तव्य दे दिया था वक्तव्य क्या था कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है और मैं मानता हूं कि वो उनका बहुत बुद्धिमानी वाला काम था जो उन्होंने किया कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है जैसे ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया और ये वक्तव्य यहां के अखबारों में छपा और दूसरे देशों के अखबारों में भी छपा वैसे ही लंदन में हंगामा हुआ लंदन में हंगामा हुआ इस समय जो सरकार है टोरिस्ट टॉनी ब्लेयर जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कई एमपीज ने हंगामा कर दिया कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इतनी औकात कैसे है कि महारानी को यह कहे कि वो हिंदुस्तान ना है और अगले ही दिन फैक्स और फैक्स मैसेज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंच गए और फिर शाम को उसी प्रधानमंत्री ने अपना वो वक्तव्य बदला और दूसरे दिन अखबार में वक्तव्य आया कि ब्रिटेन की महारानी चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती है इससे ज्यादा शर्मनाक कोई दूसरी बात हो नहीं सकती एक आजाद देश का प्रधानमंत्री अपनी बुद्धिमानी से यह तय करे कि ब्रिटेन की महारानी को इस देश में आने की जरूरत नहीं फिर वही प्रधानमंत्री विदेशियों के दबाव में आकर और हिंदुस्तान के कुछ तथाकथित ऐसे बुद्धिजीवियों के दबाव में आकर जो ब्रिटेन के पैसे से पलते हैं और पोसे जाते हैं ये वक्तव्य दे कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती और ले गए उसको कहा ले गए उस जलिया वाला बाग में जहां इस देश के क्रांतिकारियों की मिट्टी है जहां इस देश के शहीदों का खून है उस जलियांवाला बाग की घटना के बारे में शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि तेरह अप्रैल सन 1919 को डायर ने बीस हजार क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई थी और उन बीस हजार क्रांतिकारियों के ऊपर जब गोलियां चलाई डायर ने तो उसमें से दो हजार क्रांतिकारी गोलियों से मर गए और 2000 क्रांतिकारी गोलियों से मर गए उसके बाद हजारों लोग भगदड़ में मर गए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक कुआं है उस कुएं में कूदे बहुत सारे क्रांतिकारी अपनी जान बचाने के लिए लेकिन कुएं में गिरने के बाद में बहुत सारे क्रांतिकारी दीवार से दूसरी तरफ पार कूदने के लिए चढ़े लेकिन दीवार से चढ़ते चढ़ते गोली लगी और नीचे गिर मर गए बीस हजार लोगों पर अट्ठारह राउंड गोलियां चलाई गई डायर का यह वक्तव्य था कि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी अगर और होती तो चलाता और भी जाता माने उस डायर ने जिसने देश के 2000 लोगों को मार दिया अपनी गोली से और हजारों लोग मारे गए भगदड़ में वहां रानी को जाने का मतलब क्या है अंग्रेजों ने अपने अत्याचार की पूरी सीमा दिखाई वो चरम था अंग्रेजी शासन के हिंदुस्तानी अत्याचारों का वो चरम बिंदु था जो तेरह अप्रैल सन 1919 को हुआ था जलिया वाला बाग तो अभी हिंदुस्तान के ऐसे दुम छल्ले लोग जो अंग्रेजों के समर्थक हैं रानी के समर्थक हैं कम विदेशी कंपनियों के समर्थक हैं उन्होंने अभी क्या बयान दिया कि महारानी को वहां ले गए हैं जलियावाला बाग में माफी मांगने के लिए काहे की माफी और किसकी माफी क्या माफी ऐसे मांगी जाती है कि गोली निकालो और किसी को मार दो और वो मर जाए तो उसके बाद कहो आई एम सॉरी ये कोई मतलब है माफी मांगने का और ऐसी माफी मांगने के लिए हम कोई बहुत लालायक नहीं है और पिछले पचास साल में ब्रिटेन ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे ये बात झलकती हो कि उन्होंने प्रायश्चित किया वाला बाग की जमीन पर ले जाकर रानी ने उस मिट्टी को अपवित्र किया है जो शहीदों के खून से रंगी गई थी तेरह अप्रैल सन उन्नीस सौ उन्नीस उसका अपमान किया है हिंदुस्तान में महारानी को बुलाना मैं हिंदुस्तान के उन सारे शहीदों का अपमान मानता हूं उन शहीदों की शहादत का अपमान मानता हूं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान दी ऐसे शहीदों की शहादत का अपमान है हिंदुस्तान में रानी को बुलाना और हिंदुस्तान की सरकार ने अपने गुलामी को किस तरह से दिखाया है इस देश में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की रानी के सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ वो कार्यक्रम दिल्ली में नेशनल म्यूजियम की तरफ से आयोजित हुआ तो नेशनल म्यूजियम की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ रानी के सम्मान में उस कार्यक्रम के लिए जो तो निमंत्रण कार्ड छापा गया निमंत्रण पत्र छापा गया उसमें रानी का नाम ऊपर है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे इससे ज्यादा राजनीतिक गुलामी का दूसरा कोई सबूत नहीं हो सकता मेरे देश का राष्ट्रपति अगर एक स्वाभिमानी देश का राष्ट्रपति है मेरे देश का राष्ट्रपति अगर एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति है तो उसका नाम हमेशा ऊपर होना चाहिए बाहर का कोई भी आदमी है जरूर हमारा अतिथि है लेकिन हमारे देश के प्रथम पुरुष से ऊपर नहीं हो सकता वो नीचे ही होगा लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी गुलामी का सबूत दिया कि जब रानी का नाम ऊपर था और राष्ट्रपति का नाम नीचे ये दूसरा गुलामी का सबूत है इस देश में आप मानते रहो कि ये देश आजाद हो गया है मैं मानता नहीं कि यह देश आजाद हो गया अगर यह देश आजाद होता तो राष्ट्रपति का नाम ऊपर होता रानी का नाम नीचे होता जब यह देश गुलाम था तब यह परंपरा थी जब यह देश गुलाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे इस देश के आजादी आई गई थी सन उन्नीस की बात है तब उस जमाने में प्रधानमंत्री का नाम नीचे छपता था इंग्लैंड के राजा का नाम ऊपर छपता था क्योंकि देश गुलाम था उन्नीस सौ सैंतालीस में ये देश अगर आजाद हो गया पंद्रह अगस्त को तो ये दुर्घटना उन्नीस सौ सत्तानवे में कैसे हो गई और आप इसको कहें कि ये कोई छोटी दुर्घटना ये कोई अनजाने में हुई दुर्घटना ऐसा नहीं है बहुत सोच समझकर बहुत जानबूझकर की गई दुर्घटना है ये ताकि हिंदुस्तान के लोगों को आज भी बता दिया जाए कि तुम्हारी औकात कहां है अभी भी रानी तुम्हारी रानी है हमारी महारानी है और हमारे राष्ट्रपति उसके नीचे है और तीसरी बात कि रानी यहां आई है उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं बिना पासपोर्ट के रानी हिंदुस्तान में आई दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं है आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आपको अपने देश में पासपोर्ट की जरूरत नहीं क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं तो क्या ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी और उसको पासपोर्ट की जरूरत छोड़ दीजिए जब पासपोर्ट की जरूरत नहीं है सरकार ने ये कह दिया कि आप बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं तो वीजा की भी जरूरत नहीं है उसको ये काम तो तब होता है जब कोई अपने देश का नागरिक व्यक्ति अपने देश में सफर करे आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं अगर आप बाहर के किसी देश से हिंदुस्तान में आए तो आपको यहां पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं या अपने देश से एक शहर से दूसरे शहर जाए तो आपको इस देश में पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं ये माना जाता और ये शायद हर देश में होता लेकिन ब्रिटेन की महारानी का हिंदुस्तान में बिना पासपोर्ट के आना क्या बताता इतना ही बताता है कि ब्रिटेन की महारानी को इस देश में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है तो शायद इसका अर्थ यह भी निकलता है कि ब्रिटेन की महारानी आज भी हिंदुस्तान की नागरिक है क्योंकि 1946 के पहले वो इस देश की नागरिक होती और ऐसा एक बार नहीं हुआ तीन बार हो चुका है पंडित नेहरू के जमाने में सन उन्नीस को महारानी को बुलाया गया याद करिए जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनको यह घटना याद हो और उन्नीस में जब ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में बुलाया गया था तब भी यह बहस हुई थी पार्लियामेंट में और उस बहस में पंडित नेहरू ने यही जवाब दिया था कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है तो कई हल्पीज ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या हम ये माने कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है पंडित नेहरू चुप्पी लगा गए थे इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया था पार्लियामेंट वही सवाल अब फिर उठा है क्या ब्रिटेन की रानी आई है उसको हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है तो क्या ब्रिटेन की महारानी इस देश की नागरिक है और अगर यह घटना सिद्ध हुई है तो उससे यही पता चलता है कि वो आज भी इस देश की नागरिक है तो हमारी आजादी का क्या हुआ चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस की रात को बारह बजे जो कुछ आपने देखा है वो क्या हुआ फिर जिनसे आपने आजादी हासिल की है उन्हीं लोगों के लिए अगर आपके देश में वही व्यवस्थाएं हैं जो गुलामी के पहले थी तो कैसे माने कि देश आजाद है ये देश की राजनीतिक गुलामी का सबसे बड़ा सबूत है जो अभी पिछले दो तीन दिन में आपकी आंखों के सामने आया हमसे अच्छे तो पाकिस्तानी लोग जिन्होंने रानी के आने की खबर सुनते ही सबसे बड़ा प्रदर्शन किया कराची एयरपोर्ट और वहां की सरकार को उन्होंने बता दिया कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हमारे देश में हुई तो शायद नवाज शरीफ की सरकार को रहना मुश्किल हो जाएगा वहां पर हमसे अच्छे तो बोलो यहां तो देश में सन्नाटा है कहीं कोई बोलता नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ब्रिटेन की महारानी की यात्रा को अपना प्रश्न नहीं बनाया इस देश का इतना बड़ा असम्मान हुआ इस देश की अस्मिता पर प्रश्न लगा दिया कि राष्ट्रपति का नाम नीचे है रानी का नाम ऊपर है हिंदुस्तान की किसी राजनीतिक पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया क्यों क्योंकि यहां तो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रवादी कहती हैं अपने आप को जो हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को वो क्यों मौन है कांग्रेस ही मौन है समझ में आता है क्योंकि वो हमेशा से ब्रिटेन के पिट्ठू रहे वो मौन है तो समझ में आता है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों मौन है जो जिंदगी भर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की बात करती रही सीपीआई और सीपीएम की राजनीतिक पार्टियां वो क्यों चुप हैं इसलिए चुप है कि महारानी का आगमन करने में उनके भी मंत्री एयरपोर्ट पर शामिल हैं तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियां क्यों चुप हैं जो नरेंद्र सम्मान के प्रश्न को इतना बड़ा बना देते हैं उनको इतनी बड़े अपमान के प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या इस देश में वो इसलिए चुप है कि उनको लगता है कि आने वाले समय में सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है और उन्होंने ये मान लिया है कि बिना इन विदेशियों के सहयोग के अब सत्ता हाथ में आ नहीं सकती इसलिए वो चुप है तो देश का सम्मान किसको दिखाई दे रहा है देश की अस्मिता किसको दिखाई दे रही है और ऐसे प्रश्न अगर इस देश में उठाए नहीं जाएंगे तो किन प्रश्नों के लिए हमने ये राजनीतिक पार्टियां बनाई और किन मूल्यों के लिए इस देश में राजनीतिक गठबंधन चलते हैं जब देश का सम्मान ही नहीं है देश की अस्मिता ही नहीं है तो फिर कौन से प्रश्न हैं जो राजनीतिक पार्टियां हल करना चाहती हैं इस देश में मैं इंतजार कर रहा हूं पिछले एक हफ्ते से किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है महारानी की यात्रा उससे अच्छे तो वो लोग हैं देश के जिन्होंने अपनी छोटी शक्ति के आधार पर रानी का विरोध किया आजादी बचाओ आंदोलन ऐसे ही लोगों में से एक आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे मेरे कम से कम डेढ़ हजार साथी उस दिन लाठीचार्ज में घायल हुए जिस दिन रानी एयरपोर्ट पर उतरी क्योंकि आजादी बचाओ आंदोलन का ये पंद्रह दिन पहले का फैसला था कि अगर रानी उतरेगी तो हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे हिंदुस्तान की माटी में अभी भी वीर हैं ये वीर विहीन नहीं हुई है ये बात हम बताएंगे उससे महीने में डेढ़ हजार साथियों पर लाठीचार्ज हुआ और अभी भी उनमें से कई साथी जेल में बंद हैं पुलिस की हिरासत में क्यों क्योंकि हमने राष्ट्रीय प्रश्न उठाया हमने सत्य उठाया जो राजनीतिक पार्टियां बोलने में डर रही हैं ऐसा सच हमने बोला और ऐसे सच बोलने का इनाम क्या मिला है लाठीचार्ज और पुलिस की हिरासत कई साथी अभी भी दिल्ली में बंद हैं मैं कल इलाहाबाद में था शाम को और मेरे इलाहाबाद में इमरजेंसी बैठक थी इसी बात के लिए कि जो बंद है उनको छुड़ाया कैसे जाए मैंने सबसे कहा है कि हमने कोई भीख नहीं मांगी है हम बेल नहीं करवाएंगे किसी भी साथी को क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है अगर हम जेल में गए देखो पुलिस में कितना दम है उनको अंदर रखने की तो शायद मुझे कल ये याद आ रहा था कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम का विरोध हुआ होगा तब इस देश के सैकड़ों लोग लाठियों से घायल हुए थे ये मैंने इतिहास में पढ़ा और सैकड़ों लोगों को अंग्रेजों की पुलिस ने जेल के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि जॉर्ज पंचम का विरोध कर रहे थे आज भी वही हो रहा है कैसे माने कि उन्नीस और उन्नीस में कोई फर्क है उस जमाने की राजनीतिक पार्टियां जिनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस के साथ दूसरी राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां थी 1911 में वो सब रानी के समर्थन में खड़े थे आज भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियां सब रानी के समर्थन में खड़ी कोई भी विरोध में नहीं देश में जो 1911 का समय था वही समय है 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन गाया था जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए अभी फिर जनगणमन गाया गया था रानी का स्वागत करने के लिए उन्नीस में जॉर्ज पंचम को 21 तोपों की सलामी दी गई थी अभी फिर तीन दिन पहले रानी को 21 तोपों की सलामी दी गई ग्यारह में जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा मेहमान था आज भी महारानी हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी मेहमान है हिंदुस्तान के सारे के सारे प्रोटोकॉल छोड़कर हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री रानी के आगे पीछे वैसे ही घूम रहे हैं जैसे 1911 में जॉर्ज पंचम के आगे पीछे घूमा करते थे ये खूब सोच समझ कर याद दिलाने के लिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और ब्रिटेन की रानी अकेले नहीं आई उसके साथ ब्रिटेन की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी आए हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे जॉर्ज पंचम के साथ जॉर्ज पंचम अकेला नहीं आया जॉर्ज पंचम के साथ जहाज भरकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे रानी अकेली नहीं आई है उसके साथ ब्रिटेन की तमाम विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी जहाज भरकर आए हैं क्यों आए हैं ताकि ब्रिटेन के उस आर्थिक साम्राज्यवाद को फिर से इस देश में पुख्ता कर सके जो कभी हिंदुस्तान में उन्नीस के समय में चलता मेरा दिल पिछले पांच छह साल से बहुत दुखी पिछले पांच छह दिनों से बहुत दुखी और यह मेरा सबसे बड़ा दुख है और उससे भी बड़ा दुख यह है कि सारा देश मौन होकर यह तमाशा देख रहा है गांव गांव गली गली में यह आंदोलन चलना चाहिए था रानी के विरोध का वो नहीं हुआ राजनीतिक पार्टियां मौन होकर सुन रही हैं हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी लोग चुप बैठे हैं राष्ट्रवादी संगठन चुप बैठे हैं किसी भी संगठन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया ये मुझे बहुत दुख लग रहा है और कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये धरती एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले तमाम संगठन है दूसरी तरफ जिन शहीदों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी जान दी थी उन शहीदों का अपमान करने वाली रानी जब अमृतसर जाती है तो कोई बोलता नहीं है आदमी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो गुलाम है कि आजाद है आदमी का कर्म बताता है कि वो गुलाम है और आजाद है हर गलत काम करने का अगर विरोध नहीं करता कोई आदमी तो वो गुलाम और हर गलत काम करने का विरोध करने की जो हिम्मत करता है वही आजाद है मेरे मानने में आजादी और गुलामी की यही परिभाषा है कि जो आदमी अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि ये गलत हो रहा है उस गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता वो सब गुलाम है और जो आदमी गलत को देख रहा है और गलत को गलत कहने की हिम्मत करता वही आजाद है तो शायद 1911 में भी कुछ लोग ही होंगे मुट्ठी भर जो आजाद मांगते होंगे अपने आप को आज भी उन्नीस में वही मुट्ठी भर लोग दिखाई देते हैं जो आजाद मांगते हैं और रानी का विरोध करते हैं ये आपके देश में आजादी की पचासवीं सालगिरह नहीं मनाई जा रही है बल्कि आपको गुलामी के दिनों की याद दिलाई जा रही है और एक एक करके ऐसे ही लोगों को बुलाया जा रहा है जो आपको गुलामी के दिनों की याद दिला सके ब्रिटेन की महारानी उसमें से एक कदम है हो सकता है कल को कोई दूसरा व्यक्ति आए हो सकता है उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने इस देश को एक एक करके गुलाम बनाया हो सकता है पुर्तगालियों की तरफ से कोई राजा आ जाए जिसने कभी अपने अपने खानदान के लोगों ने हिंदुस्तान में शासन किया हो और वो आपको याद दिलाने के लिए आए कि देखो चौदह सौ अठानवे में हमने वास्को डिगामा को भेजा था इस देश को गुलाम बनाने के लिए अब फिर हम आए हैं तुमको याद दिलाने के लिए कि तुम हमारी ही गुलामी में हो स्पेन के और फ्रांसीसी कुछ लोग आ जाए जो इस देश को फिर वही याद दिलाएं कि तुमको हमने ढाई सौ तीन सौ साल पहले कैसे बर्बाद किया अब फिर हम ऐसे ही गुलामी के जश्न मनाए जाते हैं और ये देश की सरकारें जश्न मना रही हैं राजनीतिक पार्टियां उनमें शरीक हैं मैं मानता हूं कि ये सब के सब एक साजिश के साथ पूरे देश को गुलाम बनाने में जुटे हुए हैं और जिस तरह से उस जमाने में टैगोर खानदान और टैगोर जैसे हजारों खानदान होते होंगे जो अंग्रेजों का गान करते होंगे अंग्रेजों की स्तुतियां गाते होंगे वैसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं है जिनको अंग्रेजों से कुछ मिलता था जिनको अंग्रेजी सरकारों से कुछ मिलता था जिनको लालच रहता था कि अंग्रेजी सरकार का गुणगान करेंगे तो हमको निराय बहादुरी मिल जाएगी ऐसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं जो गान गाएंगे विदेशी कंपनियों के जो गान गाएंगे महारानी के और ये सिद्ध करेंगे कि महारानी की हिंदुस्तान की यात्रा बहुत जरूरी थी ऐसा भी कहने वालों की कमी नहीं लेकिन ये तो आपको अपने विवेक से तय करना होगा आपको अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का इस्तेमाल करके तय करना पड़ेगा कि कौन इस देश के हित चिंतक है और कौन इस देश के वैसे ही द्रोही है जैसा द्रोह कभी टैगोर खानदान ने इस देश में और मैं मानता हूं कि इस देश में वो गुलामी का गीत आज भी गाया जाता है तो वो बार बार याद दिलाता है जॉर्ज पंचम इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि कभी भी जनगणमन जैसा भाइया गीत न गाएं आपको एक दूसरी बात और बता दूं कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में बाकायदा तय हो गया था कि ये जनगणमन वाला गीत हटा दिया जाएगा ये रखा नहीं जाएगा लेकिन बाद में धोखे से आजादी के समय इस देश में ऐसा गठबंधन चला कि वो जनगणमन वाला गीत ही इस देश का राष्ट्रीय गीत इन्होंने बना दिया और आप सोचिए कि गुलामी के प्रतीक उस गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाने में समय नहीं लगा लेकिन वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत माना जाए इसमें पचास साल लग गए तब जाके अभी स्वीकार हुआ ये देश कैसी गुलामी में फंसा हुआ है उसका एक नमूना आप देख सकते हैं गुलामी शरीर से नहीं होती गुलामी मन की होती है शरीर की गुलामी तो ज्यादा खतरनाक नहीं होती वो आज है कल नहीं रहेगी परसों चली जाएगी लेकिन ये जो मन की गुलामी आ जाती है ये पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती चली जाती है ये खत्म नहीं होती चलती और उस मानसिक गुलामी का ही प्रतीक है इस देश में आज भी जनगा मन का गाया जाना और हिंदुस्तान में मानसिक गुलामी का ही दूसरा प्रतीक है कि आजादी के 50 साल के बाद वंदे मातरम का हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत जैसे स्थान पर आना ये मानसिक गुलामी के ही प्रतीक है यह तो आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था वंदे मातरम माला की लेकिन आजादी के तुरंत बाद हो नहीं पाया और उसके लिए पचासों तरह के तर्क उस समय की सरकार ने जुटाए थे शायद आज भी वही तर्क हिंदुस्तान की सरकार ने जुटाती जो तर्क उस जमाने में दिए जाते इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी है कि कैसे होगा इस देश में क्या होगा अगले पांच साल अगर ऐसे ही मौन के साथ हम सब कुछ स्वीकार करते चले जाएंगे तो हमारे पुरखों ने भी यही किया था जो गलती आप कर रहे हैं हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकार किया हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के व्यापार को स्वीकार किया हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के साम्राज्य को स्वीकार किया हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजी शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया वरना यह कोई तर्क मेरे समझ में नहीं आता कि मुट्ठी भर अंग्रेज जिनकी संख्या मुश्किल से पचास हजार थी वो चौंतीस करोड़ लोगों के ऊपर ढाई सौ साल शासन कर गए ये बात गले के नीचे उतरती नहीं अंग्रेजों की सबसे बड़ी संख्या इस देश में थी सन उन्नीस और 1942 में अंग्रेजों की पूरी संख्या इस देश में पचास हजार थी बस पचास हजार संख्या वाले अंग्रेज चौंतीस करोड़ लोगों के ऊपर शासन करते रहे ये बात गले के नीचे नहीं उतर कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि वो चौंतीस करोड़ लोग अगर एक लाइन में खड़े होकर फूक भी मार देते तो पचास हजार अंग्रेज उसमें उड़ गए होते लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना ऐसा हुआ नहीं उन अंग्रेजों का मौन उन अंग्रेजों का शासन पूरे मौन के साथ स्वीकार करते चले गए और ये मौन जो होता है ये गुलामी का ही प्रतीक होता है हमारे पुरखों ने अगर ठीक से मुंह खोला होता तो मदाल क्या कि अंग्रेज इस देश पर राज कर जाते क्योंकि अंग्रेज जब राज करने आए थे तब उनके पास तीन सौ साढ़े तीन सौ सिपाही थे ज्यादा सिपाही भी नहीं और हमारे पास एक एक राजा के पास अठारह अठारह हजार की फौजें थी एक एक राजा चाहता तो अंग्रेजों को मार के भगा दिया होता लेकिन चूंकि अंग्रेजों का इस देश में स्वागत करने वाले लोग मौजूद थे और अंग्रेजों की दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे इस देश से गद्दारी करके अंग्रेजों से दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे इसलिए अंग्रेज इस देश में टिक पाए और शासन कर पाए वो आज भी आज भी रानी का स्वागत करने वाले विदेशी कंपनियों की तरफदारी करने वाले बहुत सारे लोग आज भी हैं इस देश में उनकी कोई कमी थोड़ी जिस तरह से उन लोगों को उस जमाने के समाज ने प्रतिष्ठा दे रखी थी ऐसे ही लोगों को आज भी आपके समाजों में प्रतिष्ठा मिली हुई है आजादी के 50 साल के बाद कोई आदमी यह लिख सकता है कि विदेशी कंपनियां इस देश के लिए बहुत जरूरी है तो मैं मानता हूं कि यह मुर्दा समाज की निशानी है ये मानसिक गुलामी की निशानी है कि ढाई सौ साल के इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद भी यह समझ में नहीं आता कि अंग्रेज इस देश का भला कर रहे थे कि इस देश का सत्यानाश कर रहे थे और दुर्भाग्य से आपको इतिहास भी वही गलत पढ़ाया गया जिंदगी भर आप गलत इतिहास पढ़ते आए और उस गलत इतिहास के आधार पर गलत चीजें लिखी जा रही हैं और मानते हैं कि यही सही है जो अंग्रेजों ने पढ़ाया वही सही मानते हैं असली इतिहास जब उनके सामने आता है तो बिलबिला जाते बचा नहीं पाते हैं बर्दाश्त नहीं होता क्यों क्योंकि असली इतिहास उनकी पोल खोलता है और ये खोलता है जिससे पता चलता है कि आप किस पाले में खड़े हैं अंग्रेजों के पाले में खड़े हैं कि राष्ट्र के पाले में खड़े वही अंग्रेजियत का इतिहास वही गुलामी का इतिहास पढ़ते पढ़ते आज हमारी दृष्टि भी गुलाम हो गई है कि हमको गुलामी दिखाई नहीं देती हमको लगता है कि यह जो पिंजरा है गुलामी का वो सोने का बना हुआ दिखने लगता उसके कष्ट नहीं समझ में आते और इसलिए नहीं समझ में आते कि एक एक घर में से एक एक कुर्बानी दी होती तो समझ में आता हिंदुस्तान की आजादी की लड़त में कुर्बानी कितने लोगों ने दी कितने घरों से कुर्बानी हुई मुश्किल से दो पांच लाख घरों से कुर्बानियां हुई और जिनके घरों से कुर्बानी हुई है उनको दर्द मालूम है आजादी का क्या है जिन्होंने कभी कोई कुर्बानी नहीं दी अपने घरों से वो जानते नहीं कि आजादी का दर्द क्या है दुनिया के दूसरे देशों में जहां एक एक घर से एक एक कुर्बानी होने के बाद आजादी मिली है उन देशों में आजादी का दर्द मालूम है कि क्या होती है आजादी लेकिन हमारे देश में अगर ये कुर्बानी दी होती है एक घर से तो हमको आजादी का दर्द मालूम होता कि आजादी होती क्या और तब गलती से भी इस देश में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले की हम जीत पकड़ सकते थे कि तुम क्या कर रहे थे लेकिन हम उसको भी सुनते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी सुनते हैं ये हमारी नपुंसकता का सबसे बड़ा प्रमाण है ऐसे ही पहले थे हमारे पुरखे मैं बार बार यही मेरे दिल को खाया जाता है कि कैसे साढ़े तीन सौ अंग्रेज सिपाही हिंदुस्तान के एक एक राजा पर कब्जा करते गए और एक एक राजा अंग्रेजों का गुलाम होता चला गया कैसे पचास हजार अंग्रेजों के अधिकारी हिंदुस्तान के चौंतीस करोड़ लोगों पर शासन करते गए और ये हिंदुस्तान दो सौ ढाई सौ साल अंग्रेजों की गुलामी में फंसा रहा एक ही कारण रहा होगा हमारा मौन और उस मौन के बारे में शायद ये कहा जाता है कि स्वीकृति ही मानी जाती है मौन कभी अस्वीकृति का बनता नहीं है लक्ष्य ज्यादा समय में तो स्वीकृति का ही लक्षण बनता है और शायद अंग्रेजों को यही लगा होगा कि हिंदुस्तानी लोग तो मौन रहते हैं ये कुछ बोलते नहीं है जो बोल सकने की स्थिति में है वो अंग्रेजों का गुणगान करते हैं तो जरूर इस देश में शासन करने का अच्छा मौका और इसलिए उन्होंने शासन किया इस देश आज भी महारानी को लगता है कि ये देश तो मौन है कहीं कोई राजनीतिक पार्टी बोलती नहीं है कहीं कोई आंदोलन चलता नहीं है कुछ छुटपुट लोग हैं कुछ बेवकूफ लोग हैं जो थोड़ा चिल्ला रहे हैं तो ठीक है चिल्लाने दो लेकिन समाज के बड़े लोग तो मौन है तो मौन का मतलब क्या उनकी स्वीकृति तो रानी आई है हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है पाकिस्तान में जाने की हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही है कि वहां के मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया कि रानी ने अगर कदम रखा यहां पर तो जिंदा वापस जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं तो डर लग गया इसलिए वहां जाने का कार्यक्रम बदला जा रहा हिंदुस्तान में तो किसी ने फतवा जारी नहीं किया कभी कभी मैं कहता हूं हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनको अपनी अस्मिता और अपनी अस्मत का इतना ख्याल तो है जिनके मन में अभी भी इतना जुनून तो बाकी है अपने देश की अस्मिता के लिए इतना तो बाकी है कि वो चेतावनी दे सकते हैं हमने तो ये चेतावनी देने की हिम्मत भी नहीं की हिंदुस्तान में तो इतने एमएल ग्रुप से उनमें से किसी ने भी चेतावनी देने की हिम्मत नहीं की और ये प्रश्न है जिनको अगर आप अपने दिल से नहीं पूछेंगे अपने दिल में नहीं पूछेंगे और इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाले समय में ये देश वही दुर्दिन देखेगा जो अंग्रेजों के जमाने में इस देश में देखेगा जिस तरह से महारानी का स्वागत हो रहा है वो आने वाले समय का सूचक है और शायद आपको एक जानकारी और दे दू अंग्रेजों ने बाकायदा इस देश में घुसने के लिए दरवाजा खोल के रखा अंग्रेजों की सरकार जब यहां राज करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था उस कानून का नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और यह कानून बना था अठारह सौ सतानवे में अठारह सौ सतानवे में यह कानून बना था तो अंग्रेजों की सरकार ने उस कानून में यह व्यवस्था की थी कि अंग्रेजों का कोई भी अधिकारी अंग्रेजों का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता और अंग्रेजों का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता अंग्रेजी देश का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता उसके लिए उन्होंने कानून बनाया था और वो कानून अठारह सौ सतानवे में पारित हुआ था वही अठारह सौ सतानवे का कानून आज भी इस देश में चल रहा है उन्नीस में इसलिए मुझे समझ में आया कि ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी क्योंकि अठारह सौ सतानवे के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर कोई भी अंग्रेज व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है तो माने रानी हिंदुस्तान का नागरिक है और उस कानून को चैलेंज करने की बात मैंने जैसे आदमी ने सोची कि इसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में तो अभी कल मेरे इलाहाबाद के वकील ने कहा कि राजीव भाई उस कानून की आखिरी लाइन ये कहती कि जो व्यक्ति इस कानून को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में उसको छह महीने की सजा हो जाएगी माने इतनी चतुराई के साथ वो कानून बनाया कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस कानून को चैलेंज न कर सके और उस समय कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का अधिकार किसको होता था अंग्रेजों का जो वॉय फराय होता था बाद में गवर्नर जनरल होने लगा तो वॉइस राय और गवर्नर जनरल कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता दे सकता था आज क्या फर्क हुआ है आज सिर्फ इतना फर्क है कि जो अधिकार वॉइस राय या गवर्नर जनरल को था वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को है बाकी कोई फर्क नहीं तो बात समझ में आ गई हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और महारानी का आपस में कुछ चला होगा उन्होंने तय कर लिया कि मेरा नाम नीचे जाए तो क्या बांधा है रानी का नाम ऊपर चला जाना चाहिए और वो गया है और इसको इस देश की सरकार अपनी गलती नहीं मानती वो मानते नहीं है कि हमने कोई गलती की बल्कि जोर जबरी से कह रहे हैं कि ये ठीक ही किया है हमने तो वो आप समझ लीजिए अगर हिंदुस्तान की सरकार उसको ठीक मानती है तो इससे भी आगे की बात समझ लीजिए कि रानी इस देश की नागरिक है और अगर रानी इस देश की नागरिक है तो कभी भी इस देश में राज करने के लिए वैसे ही तैयारी करेगी जैसे अंग्रेजों ने इस देश में राज करने की तैयारी की क्योंकि कानून है कानून से उनको इस देश का नागरिक बनने का हक है और जब तक वो कानून इस देश में है विदेशी लोग नागरिक बन सकते हैं मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि जो लोग बांग्लादेश के नागरिकों को हिंदुस्तान का नागरिक मानने पर हंगामा करते हैं वो रानी के प्रश्न पर हंगामा क्यों नहीं करते क्यों चुप है वो जो चटगांव की पहाड़ियों से आने वाले बांग्लादेशी नागरिक हैं उनके हिंदुस्तान में नागरिक बनाए जाने पर हंगामा कर सकते हैं वो सारे के सारे संगठन और पार्टियां मौन क्यों हैं क्यों नहीं इस प्रश्न पर हंगामा कर रहे पार्लियामेंट में उनकी छोटी मोटी जमात नहीं है बहुत बड़ी जमात है और पार्लियामेंट के बाहर तो उनके पास इतने संगठन हैं लेकिन सब मौन है सब खामोश है इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करता धृतराष्ट्र जब सभा में मौन था और धृतराष्ट्र के सामने सब कुछ चल रहा था धृतराष्ट्र को इस देश के इतिहास ने कभी माफ नहीं किया है और इन सबको मैं धृतराष्ट्र जैसा ही मानता हूं तब तो फिर भी अच्छा था कि उसकी आंखें नहीं थी अंधा था इन सबकी तो आंखें होते हुए भी ये अंधे बनकर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर उसका अपराध तो माफ किया जा सकता है क्योंकि उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था इनका अपराध हम कैसे माफ कर सकेंगे आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो कोई छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इतिहास बहुत निर्मम होता है अगर सोवियत संघ में लेनिन जैसे आदमी को जिसको एक जमाने में देवता माना जाता था उस लेनिन की मूर्तियां तोड़ सकते हैं वहां के लोग तो आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसमें इन लोगों को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब रानी आई थी तो तुम क्या कर रहे थे उन्नीस सौ इकसठ की बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी थी नहीं उन्नीस सौ सतानवे की बात कैसे समझे कांग्रेस तो आज इस देश में पार्टी ही नहीं है कांग्रेस से ज्यादा शक्तिशाली पार्टियां तो दूसरी हैं लेकिन सब खामोश हैं क्यों क्योंकि सत्ता की कुर्सी की ऐसी अंधी दौड़ मची है किसी को फुर्सत ही नहीं है ऐसे गहरे सवालों पर सोचने की और चिंतन करने किसी को फुर्सत नहीं फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हंगामा हो गया होता फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की सड़कों पर आंदोलन हो गया होता फुर्सत होती तो हिंदुस्तान के गली गली गांव गांव में रानी के विरोध में पोस्टर छप गए होते क्योंकि छपते ही जब उनके अपने मतलब के इश्यूज होते हैं तो गांव गांव में पोस्टर छप जाते हैं गांव गांव में पोस्टर बट जाते हैं लेकिन इस बार नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ कहीं से कोई आदेश नहीं है मैं एक एक से पूछ रहा हूं तुम्हारे संगठन में उन पर से कोई आदेश है नहीं राजीव भाई इस प्रश्न पर कोई आदेश आपकी पार्टी में कहीं कुछ हो रहा नहीं राजीव भाई कोई बात भी नहीं हो रही है क्या हो रहा और कैसे हम सब चुपचाप बैठकर सुन ऐसे ही मौन से ये देश गुलाम हुआ था वैसा ही मौन इस देश में पसरा हुआ और रानी अकेले नहीं आई है उसके साथ सौ डेढ़ सौ विदेशी कंपनियों के अधिकारी आए वो धनाधन इस देश की सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं विदेशियों को इस देश में खुली छूट है हिंदुस्तान से रानी के आने के पहले भी विदेशियों को खुली छूट थी रानी के आने के बाद तो और तेजी से हो गई और रानी को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण किस तरह से दिया गया था उसका एक अंदाजा आप लगाइए हिंदुस्तान का जो इस समय का वित्त मंत्री है जिसका नाम है चिदम्बरम ये उन्नीस में लंदन गया दो अक्टूबर उन्नीस को लंदन में इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट दुनिया भर के अखबारों में छपा हिंदुस्तान में भी छपा क्या स्टेटमेंट दिया था अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए ये वित्त मंत्री कह रहा चिदम्बरम अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया आप अगले 200 साल के लिए फिर आइए और इस देश को लूट कर ले जाइए there will be a reward for you माने आपको बड़ा इनाम मिलेगा इस देश को लूटने के लिए ये ओपन इनविटेशन था हिंदुस्तान के वर्तमान वित्त मंत्री का 2 अक्टूबर उन्नीस को लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रानी आई इसलिए रानी के साथ ब्रिटेन के अधिकारी आए और इसलिए उन सारे अधिकारियों को इस देश में भेजा गया है ताकि हिंदुस्तान को लूट के लिए वैसे ही कब्जे में लिया जाए जैसे अंग्रेजों की सरकार ने इस देश को लूटने के लिए कब्जे में लिया और एक बात और जान लीजिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे बहुत लोगों को यह फहमी है मुझको भी गलत फहमी है क्योंकि इतिहास ही गलत लिखा गया हमारे इतिहास में यह लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए लेकिन अभी मेरे पास जो दस्तावेज मिले हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए नहीं थे व्यापार तो बहाना था वो असलियत में हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए आए और ये बात मुझे कहां से पता चली ये बात मुझे पता चली सन 1813 का लंदन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन का एक दस्तावेज मेरे पास है जिसको मैं अभी छापने वाला हूं मेरी एक पुस्तक आ रही है उसका नाम है आजादी के पचास साल या गुलामी के पांच सौ साल उसमें ऐसे में पांच हजार से ज्यादा दस्तावेज छापने जा रहा हूं उनमें से वो एक दस्तावेज है और वो दस्तावेज क्या है 24 जून सन 1813 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक डिबेट चल रही है और डिबेट क्या है डिबेट का टाइटल है how to Christianize India Hindustan को क्रिश्चियन कैसे बनाया और उसी डिबेट का एक दूसरा हिस्सा है जिसको कंक्लूडिंग पार्ट कहते हैं कंक्लूडिंग डिबेट कहा जाता है वो डिबेट का दूसरा हिस्सा है how to propagate Christian religion in India दोनों एक ही मतलब रखते हैं how to propagate Christian religion in India and how to Christianize India दोनों का मतलब एक ही हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए और हिंदुस्तान में ईसाई धर्म कैसे फैलाया जाए फिर तो अठारह में 24 जून को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए और हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए जब यह प्रस्ताव पारित होता है तो मेरे जैसे लोगों के कान खड़े हो गए हैं जब से मैंने वो प्रस्ताव पढ़ा कि इस देश में अंग्रेज क्या व्यापार करने आए थे इस देश में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी माल बेचने के लिए आई थी व्यापार करने आए नहीं थे माल बेचने आए नहीं थे व्यापार बहाना था माल बेचना बहाना था क्योंकि अगर वो सामने से आके आपको कहते कि हम आपको ईसाई बनाने के लिए आए हैं तो शायद आप अपना दरवाजा बंद कर देते इसलिए वो पहले तराजू लेकर आए थे इस देश में पहले तराजू लेकर घुसे थे उसके बाद उन्होंने इस देश में अपना असली रूप दिखाया और वो डिबेट जब पारित हुई है तो उस डिबेट के समर्थन में 89 वोट्स पड़े हाउस ऑफ कॉमन और 89 वोट से वो डिबेट पारित हुई बहस पूरी हुई उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बनी और उस पॉलिसी का मूल वाक्य यह था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है और बाद में अंग्रेजी पार्लियामेंट में जब वो डिबेट पूरी हो रही है तो जितने एमपीज ने डिबेट के समर्थन में वोट दिया सबके भाषण है अस्सी पन्ने का डॉक्यूमेंट है मेरे पास सबके भाषण है और हर एमपी का भाषण एक ही बात कह रहा है कि हमारा मूल उद्देश्य हिन्दुस्तान को ईसाई बनाने का है न कि व्यापार करने का तो उसमें बात क्या चल रही है वो समझ लीजिए तो आज आपको समझ में आ जाएगा महारानी का हिंदुस्तान में आना बहस यह चल रही है कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बनाना बहुत मुश्किल है क्यों क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को आसानी से क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता तो क्या करना पड़ेगा तो एक एमपी समझा रहा है कि हमको चरणबद्ध तरीके से माने स्टेप बाय स्टेप बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी और लंबी प्लानिंग क्या होगी हिंदुस्तान को तब तक ईसाई नहीं बनाया जा सकता जब तक हिंदुस्तानी प्रजा का सत्यानाश ना किया जाए हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद ना किया जाए और हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करना क्यों जरूरी है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एमपी कह रहा है इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तानी प्रजा को आप जब तक गरीब नहीं बनाएंगे बेरोजगार नहीं बनाएंगे तब तक ये ईसाई बनने को तैयार नहीं होगी और वही एमपी कह रहा कि जब यहां की प्रजा गरीब हो जाएगी बेरोजगार हो जाएगी तो गरीब आदमी का बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता उसको पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता उसको किसी और तरीके के लालच में देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता आज भी इस देश में जितना धर्म परिवर्तन चलता है वो आप देख लीजिए सबसे गरीब आदिवासी इलाकों में ही चलता क्योंकि गरीब आदमी बहुत आसानी से धर्म बदलने को तैयार हो जाता है पेट की आग उसको मजबूर करती है और उस जमाने की यह पॉलिसी थी अंग्रेजों की सरकार तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तानी प्रजा को गरीब बनाना है बेरोजगार बनाना है ताकि हमारे रास्ते में धर्म परिवर्तन का जो काम है वो आसानी से चलता रहे तभी उन्होंने ये फैसला भी किया था कि हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए हिंदुस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद किया और हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाएगा तब एक एमपी है जो जवाब दे रहा है कि बहुत आसान है ये बहुत आसान काम है और ये कैसे हो जाएगा तो वो एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आदेश देंगे कि वो हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करे तो एक दूसरा एमपी पूछ रहा what do you mean by free trade तो एक एमपी जवाब दे रहा कि फ्री ट्रेड का माने जब ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तानी माल बिकना बंद हो जाएगा तब होगा फ्री ट्रेड दूसरा माने वो समझा रहा है कि फ्री ट्रेड का माने क्या हिंदुस्तान का कच्चा माल हिंदुस्तान से इंग्लैंड आएगा और इंग्लैंड में वो पक्का माल बनेगा और उसके बाद वापस हिंदुस्तान में बिकेगा तब होगा फ्री ट्रेड तो फिर वो एमपी पूछ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है ये कैसे संभव है तो जवाब दिया जा रहा है उसको कि इसका बहुत आसान तरीका है ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में बिकता है उस सबको टैक्स फ्री कर दो और हिंदुस्तानी कंपनियां जितना माल बनाती हैं उस पर टैक्स लगा दो तो हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाते चले जाओ तो हिंदुस्तानी कंपनियों का माल महंगा होता चला जाएगा और ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री कर दो तो वो सस्ता हो जाएगा तो ब्रिटेन का माल जब सस्ता हो जाएगा तो गांव गांव में ब्रिटेन का माल बिकेगा और हिंदुस्तानी कंपनियों का माल जब महंगा हो जाएगा तो गांव गांव में हिंदुस्तानी कंपनियों का माल बिकना बंद हो जाएगा तो ये पॉलिसी उन्होंने चलाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री ट्रेड और उस फ्री ट्रेड के लिए बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया जिस चार्टर का नाम ही था चार्टर फॉर फ्री ट्रेड और अंग्रेजों के फ्री ट्रेड का माने क्या था कि अंग्रेजों का माल ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री हो जाए और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाकर उनका माल महंगा बना दिया जाए तो अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू किया सबसे पहले हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अंग्रेजों की सरकार ने जो टैक्स लगाया उसका नाम था उत्पाद का कर एक्साइज टैक्स माने जो व्यापारी माल पैदा करते हैं कारखानों में उस माल के उत्पादन पर कर लगाओ तो उसको अंग्रेजों ने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज टैक्स उसके बाद अंग्रेजों ने तय किया कि जो माल कारखाने में बनता है और बाजार में बिकने के लिए जाता है तो माल की बिक्री पर भी कर लगाओ अंग्रेजों ने उसका नाम दिया सेल्स टैक्स तो कारखाने में माल पैदा हो उसके उत्पादन पे कर और माल जब बिक रहा है तो उसकी बिक्री पे कर और उसके बाद उस माल की बिक्री से जो आमंदनी होगी उस पर भी टैक्स उसका नाम उन्होंने रखा इनकम टैक्स और उसके बाद चौथा टैक्स लगाया अंग्रेजों की सरकार ने कि हिंदुस्तान के व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव में जो माल ले जाते हैं उस माल के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगाओ तो अंग्रेजों की सरकार ने दो टैक्स लगाए एक तो ऑक्ट्रॉय का टैक्स और दूसरा टोल टैक्स और ये पांच पांच कर लगा दिए हिंदुस्तान के व्यापारियों पर नतीजा क्या निकला हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल पैदा करती थी वो बहुत महंगा हो गया और ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आता था आता था वो सब टैक्स फ्री हो गया हिंदुस्तानी कारखाने बंद हो गए और हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए गरीब हो गए भुखमरी आई इस देश में और अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था इस देश पर मजबूती से काबिज हुई दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पांचों टैक्स के कानून अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में चलाए थे वो आजादी के 50 साल के बाद भी इस देश में चल रहे हैं सेंट्रल एक्साइज टैक्स आज भी लगता सेल्स टैक्स आज भी लगता इनकम टैक्स आज भी लगता ऑक्ट्रॉय टैक्स आज भी देना पड़ता और टोल टैक्स आज भी देना पड़ता हिंदुस्तान की कई राजनीतिक पार्टियों को मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव जीतने के पहले ये वायदे किए थे कि हमको आप एक बार सत्ता में पहुंचा दीजिए हम टोल टैक्स खत्म कर देंगे ऑक्ट्रॉय टैक्स खत्म कर देंगे और कई पार्टियों ने तो ये भी कहा था कि हम सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे लेकिन उन सारी पार्टियों को आपने सत्ता में पहुंचाने के बाद देखा है एक भी पार्टी ने ना टोल टैक्स खत्म किया ना ऑक्ट्रॉय खत्म किया और ना सेल्स टैक्स खत्म किया क्या चाहती है ये पार्टी जैसे अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था वैसे ही बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग अपने आप से भी पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं कि अगर उन्नीस में मान लिया जाए कि यह देश आजाद हो गया तो अंग्रेजों के बनाए हुए वो टैक्स के कानून क्यों चल रहे हैं इस देश में आज अंग्रेज चले गए अगर उन्नीस में तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भी खत्म हो जाने चाहिए थे उन्नीस में वो क्यों नहीं खत्म हुए और आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा अंग्रेज इस देश में जब इनकम टैक्स लगाते थे तो इनकम टैक्स की उनकी रेट थी 97 परसेंट सौ रुपए की इनकम पर अंग्रेज सरकार सतानवे रुपए का इनकम टैक्स वसूलती थी सेवन परसेंट इनकम टैक्स लगता था इसमें और आजादी आई उन्नीस सौ सैंतालीस उन्नीस सौ सैंतालीस के बीस पच्चीस साल बाद तक उन्नीस उन्नीस सौ सत्तर सौ बहत्तर तक इस देश में ninety seven percent income tax लगता रहा चलता रहा क्यों चलता है अंग्रेज तो चले गए उन्नीस सौ सैंतालीस में तो 97 परसेंट वाला इनकम टैक्स का रेट उन्नीस में खत्म हो जाना चाहिए लेकिन उन्नीस में नहीं उन्नीस सौ सत्तर उन्नीस सौ बहत्तर तक वो चलता रहा इस देश में क्यों इसलिए कि आप आजाद नहीं आप आजाद होते तो वो खत्म हो गया होता आपने आजादी आई कहा आपने आजादी ली कहा आप तो वैसे ही गुलाम है जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था कानूनों के तहत आपको गुलाम बनाया था उन्हीं कानूनों से आज भी आप संचालित होते हैं कैसे कहें कि यह देश आजाद हो और उस जमाने में जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाया उस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती उन अधिकारियों की ट्रेनिंग के समय उनको कहा जाता था एक नीति वाक्य चलता था अंग्रेजों का अंग्रेजों के जमाने में जितने टैक्सेशन कलेक्शन के ऑफिसर होते थे जो टैक्स वसूल करने का काम करते थे चाहे इनकम टैक्स के हों चाहे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के हो चाहे ऑक्ट्रॉय के हों चाहे जिस डिपार्टमेंट के उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें टैक्स वसूलें या न वसूलें आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में डिपार्टमेंट में उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें टैक्स वसूले या न वसूले आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में ये सिखाया जाता था और ये ट्रेनिंग जो अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी जाती थी वही ट्रेनिंग आज भी चालू है और आज भी अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप टैक्स वसूल कर पाए या न कर पाए लेकिन आप व्यापारियों को पूंजीपतियों को उद्योगपतियों को इतना परेशान करिए कि वो मजबूर होकर अपने कारखाना बंद कर दें ये अंग्रेजी सरकार की नीति थी वही नीति इस देश में आज भी चलती और आप बताइए आप में से जो भी आदमी कारखाना चलाता है आप बताइए एक्साइज वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते आप बताइए इनकम टैक्स वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते आप बताइए आपको सेल्स टैक्स वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते ऑक्ट्रो वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते टोल टैक्स वाले परेशान करते हैं नहीं ये व्यापारियों को परेशान करने की नीति अंग्रेजों ने बनाई थी वही नीति हिंदुस्तान में आज भी चल रही है आजादी के पचास साल के बाद कैसे माने के देश आजाद हिंदुस्तान में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त बाद में वो विक्रमादित्य हो गया और उसको विक्रमादित्य बनाने का काम चाणक्य ने किया एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त का झगड़ा हुआ क्या झगड़ा हुआ चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से चाणक्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त राजा था चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था वरना चंद्रगुप्त की कोई अपनी हैसियत नहीं थी कि वो राजा बन पाते तो एक बार चंद्रगुप्त जब राजा हो गया तो चाणक्य के साथ उसने एक बात कही क्या कहा उसने कहा कि मुझे अपना खजाना भरना है तो टैक्स बढ़ाना तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त ये गलती कभी दोबारा मत कर देना मैंने तुमको अगर राजा बनाया है तो तुमको धूल में भी मिला सकता हूं तो चंद्रगुप्त ने पूछा क्यों तो चाणक्य ने कहा कि यह बात तुम कान खोलकर सुन लो कि जो राजा टैक्स के कलेक्शन से अपना खजाना भरने का सपना देखता हो उसको एक मिनट राजा रहने का अधिकार नहीं है तो चंद्रगुप्त ने कहा फिर खजाना कैसे बढ़ेगा उत्पादकता बढ़ाओ अपने राज्य की उससे खजाना भरेगा ना कि व्यापारियों से टैक्स वसूल करके तो जब ये कहानी मैंने पढ़ी चंद्रगुप्त की और चाणक्य की तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि पता लगाना चाहिए चाणक्य के जमाने में कितना टैक्स लगता चाणक्य ने खुद लिखा है चाणक्य कहता है कि किसी भी राज्य में अगर पांच प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगता है तो वो राज्य राज्य कहने का अधिकारी नहीं है वहां सिवाय अन्याय के और कुछ हो नहीं सकता और उसके जमाने में हिंदुस्तान का स्वर्ण युग था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड कहलाता चाणक्य का जमाना हिंदुस्तान का स्वर्ण युग कहलाता है क्यों क्योंकि उस जमाने में कर सबसे कम था पांच टका से ज्यादा कर लगता नहीं था कुल मिलाकर और पांच टका से कम कर था इसलिए उत्पादकता हिंदुस्तान की उस जमाने में सबसे ज्यादा थी इसलिए व्यापार हिंदुस्तान का उस जमाने में सबसे ज्यादा था दुनिया में कुल जितना व्यापार चलता था उसका एक तिहाई व्यापार अकेले हिंदुस्तान का चलता था उस जमाने तो इसलिए इतना व्यापार था इतनी उत्पादकता थी इतनी समृद्धि थी और इसलिए इतना कैपिटल फॉर्मेशन था क्योंकि टैक्सेशन बहुत कम थे टैक्सेशन के कानून बहुत आसान थे और चाणक्य खुद मानता था कि पांच परसेंट से ज्यादा अगर टैक्स है तो वो राजा अन्यायी है इसलिए वो जमाना स्वर्णयुग कहलाता अंग्रेजों ने उसको पूरी तरह से खलास किया था 97 परसेंट तो सिर्फ उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया था कुल मिलाकर टोटल टैक्स अंग्रेजों के जमाने में लगभग 127 परसेंट का बैठता था इतना टैक्स उन्होंने लगाया और उसके बारे में जब बहस चली अंग्रेजों के पार्लियामेंट में तो अंग्रेजी सरकार के जो वो थे प्रतिनिधि जो एमपीज हुआ करते वो कहते थे कि ये दो काम होंगे जितना टैक्स बढ़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारियों पर उसके दो नतीजे निकलेंगे पहला नतीजा या तो हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे और या हिंदुस्तानी व्यापारी बेईमान हो जाएंगे बेईमान क्यों हो जाएंगे क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओगे तो व्यापारी टैक्स की चोरी करेगा और व्यापारी अगर टैक्स की चोरी करेगा तो बेईमान हो जाएगा बेईमान हो जाएगा तो बेईमान आदमी को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है तो वो कहते थे कि गुलाम बनाना उनको आसान हो जाएगा और या वो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद ही हो जाएंगे खलास ही हो जाएंगे और जब हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में फिर अंग्रेजों का ही व्यापार चलेगा और अंग्रेजी कंपनियों का ही माल बिकेगा तो उन्होंने कहा दोनों ही उद्देश्य हमारे हित में है इसलिए उन्होंने ये टैक्सेशन के कानून चलाए थे और वही टैक्सेशन के कानून आजादी के पचास साल के बाद भी चल रहे जो अंग्रेजों की नीतियां थी थी कि अंग्रेजों के देश का माल इस देश में आए तो टैक्स फ्री बिके और हिंदुस्तानी माल जो हिंदुस्तान में बने और बिके उस पर टैक्स लगाया जाए वही काम पिछले पांच और छह साल से हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के नाम पिछले पांच छह साल से क्या चल रहा है जितना माल विदेशों से आ रहा है उस पर ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं और बाहर से आने वाले माल पर जब ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं टैक्स खत्म किए जा रहे हैं तो बाहर का माल सस्ता होता चला जा रहा है और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर और हिंदुस्तानी उद्योगपतियों पर वैसे के वैसे ही टैक्स लगे हुए हैं तो हिंदुस्तानी माल महंगा होता चला जा रहा है नतीजे क्या निकल रहा है वही नतीजे निकल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में निकले हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले गए आज भी वही नतीजे निकल रहे हैं कि हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले गए मैं आपको दो तीन उदाहरण दे सकता हूं विदेशों से स्टील आता है इस देश में विदेशों से आने वाले स्टील पर ड्यूटीज खत्म कर दी है भारत सरकार काफी कम कर दी तो विदेशों का स्टील अब बिक रहा है इस देश में बहुत सस्ता और स्वदेशी स्टील बनाने वाले जो कारखाने हैं उन पर जो ड्यूटीज लगाई गई थी वो वैसी की वैसी उनमें बहुत कम कटौती की गई है विदेशी स्टील के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी इम्पोर्ट की वो बहुत बुरी तरह से कम कर दी नतीजा क्या निकला है विदेशों से आने वाला स्टील इस समय आठ हजार रूपये टन में बिक रहा है और स्वदेशी स्टील इस देश में तेरह हजार रूपये टन में बन रहा है तो स्वदेशी स्टील बनाने वाले कारखाने धीरे धीरे धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं विदेशी स्टील सारे देश के बाजारों में बिक रहा है और हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का कारखाना है जिसका नाम है steel authority of India limited वो steel authority of India limited के प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका स्टील बिकता नहीं बाहर का स्टील सस्ता है स्वदेशी स्टील महंगा है ये नीति अंग्रेजों के जमाने में बनती थी वही नीति आज आजादी के पचास साल के बाद चल ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण एक परदेशी कंपनी है वो चश्मा बेचती है उसका नाम है रेबैन रेबैन कंपनी के जो चश्मे इस देश में आते हैं उनको भी ड्यूटीज फ्री किया उनके ऊपर भी टैक्स खत्म कर दिया काफी कम कर दिया और उनके ऊपर जब टैक्स कम किया है काफी कम कर दिया है विदेशों से आने वाले रेमेन के चश्मे पर तो स्वदेशी चश्मे बनाने वाले हजारों कारखाने बंद हो गए बंबई के ही बारे में मुझे कोई भाई बोलता था पालघर के इलाके में राजीव भाई वो बोल रहा था कि एक हजार से ज्यादा छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे पालघर और आसपास के इलाके में सब बंद हो गए क्योंकि चश्मा बनाने वाली रेबन कंपनी का माल टैक्स फ्री है हिंदुस्तान में लोग जो बनाते हैं उनके ऊपर टैक्स है और ऐसे एक दो नहीं ऐसे और भी उदाहरण हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली कंपनियां उन इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली हमारे देश की कंपनियों पर टैक्स लगे हुए हैं और विदेशों से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियों पर टैक्स खत्म किया तो विदेशी टेलीविजन सस्ता है स्वदेशी टेलीविजन महंगा क्योंकि विदेशी टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों पर ड्यूटीज खत्म कर दिए गए हैं और हिंदुस्तान में स्वदेशी बनाने वाले उपकरणों पर टैक्स पैसे का वैसे ही लगा तो वो हजारों हजारों कारखाने बंद हुए और पिछले छह साल में हिंदुस्तान में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं कितने कारखाने बंद हुए होंगे उसका एक आंकड़ा एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका नाम है ILO international labour organisation international labour organisation की रिपोर्ट पाएंगे हर साल उनकी रिपोर्ट छपती है इस साल भी छपी और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले छह साल में जब से हिंदुस्तान में ये फ्री ट्रेड चला है ग्लोबलाइजेशन चला है हर साल औसतन 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं हर साल और अगर हर साल 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं तो कितने हजार कारखाने इस देश में बंद हुए होंगे हिंदुस्तान की सरकार खुद कहती है कि इस देश में चालीस हजार से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट पिछले छह साल में या तो सिख हो गए हैं या बंद हो गए क्यों बंद हो क्योंकि वो जो माल बनाते थे वो विदेशों से आने लगा सस्ता आने लगा तो वो बेचारे कैसे अपना कारखाना चलाएं ये अंग्रेजों की सरकार की नीति है वही नीति आजादी के पचास साल के बाद चल रही है इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश आज भी उतना ही गुलाम है जितना अंग्रेजों के जमाने में था अंग्रेजों ने ऐसे ही हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ और भी नीतियां बनाई थी कुछ और भी कानून बनाए थे सन अठारह में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून इस देश में बनाया था जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और वो कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया क्योंकि हिंदुस्तान में जो जंगल होते थे वो गांव समाज की संपत्ति होते थे गांव के लोग जंगलों पर अधिकार रखते और गांव समाज की संपत्ति होते थे जंगल तो गांव की पंचायतें फैसला करती थी जंगल के बारे में जंगल कटेगा कि नहीं कटेगा अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगल लूटने थे क्योंकि हिंदुस्तान के जंगलों में देश कीमती संपत्ति है हमारी सोने की खदानें जंगलों में हमारी चांदी की खदानें जंगलों में हमारी हीरे की खदानें जंगलों में हमारी कोलसा की खदानें जंगलों में हमारी हिंदुस्तान की तमाम दूसरी खदानें जंगलों में है आयरन की खदानें जितनी है वो सब जंगलों में है बेशकीमती लकड़ी भी जंगलों से मिलती है तो अंग्रेज सरकार को हिंदुस्तान के जंगल कटवाने थे और बर्बाद करने थे इसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया उस कानून के चलते क्या हुआ कि पहले जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे ग्राम पंचायत की संपत्ति होते थे वो जंगल फिर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति हो गई स्टेट प्रॉपर्टी हो गई और जैसे ही वो जंगल अंग्रेज सरकार की संपत्ति घोषित किए गए वैसे ही अंग्रेजों की सरकार ने अंधाधुंध जंगल कटवाना शुरू कर दिया मैं एक बार राजस्थान के एक इलाके में गया था अलवर के पास उस इलाके में एक जाति रहती है उसका नाम है विष्णोई जाति विष्णोई जाति के लोगों के गांव में एक बार मैं गया था व्याख्यान करने तो वहां के सरपंच से मैंने पूछा कि पहले आप अपने गांव की कहानी मुझे बताइए तो सरपंच ने कहा राजीव भाई हम तो आपको बुला के लाए व्याख्यान करने के लिए मैंने कहा मैं व्याख्यान बाद में करूंगा पहले आपकी कहानी सुनू तो उस विष्णोई गांव के सरपंच ने मुझे बताया कि एक बार हमारे गांव में अंग्रेजों ने कतले आम मचा रखा मैंने कहा क्यों तो उसने कहा कि हमारा गांव ये जो विष्णोई जाति का गांव है इसकी एक विशेषता है मैंने कहा क्या विशेषता है कि हम कभी पेड़ों को कटने नहीं देते चाहे हमारा आदमी कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कट सकते तो मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया था तो उसने बताया कि एक कानून बना दिया था पेड़ काटने का तो मैं समझ गया कि अठारह सौ पैंसठ के कानून की बात कर तब उसने बताया कि अंग्रेजों के ठेकेदार आते थे अंग्रेजों की पुलिस आती और अंग्रेजों की पुलिस हमारे जंगल काटती हमारे पेड़ काटती तो हमारे गांव की जाति की महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती तो पहले महिला कटती थी उसके बाद पेड़ कटता हजारों हजारों महिलाएं कटी थी उस विश्नोई जाति के गांव में हजारों हजारों नौजवान युवक कट गए थे पेड़ों को बचाने के और अंग्रेजी सरकार ने इतना जुलम ढाया था हमारे ऊपर मैंने कहा आपकी बात सुनकर मुझे याद आ गया कि ये कानून अठारह में अंग्रेजों ने बनाया और उस अठारह के कानून के बाद अंग्रेजों की सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किया तो मैंने कहा आप जानते हैं कि वो कानून हिंदुस्तान में आजादी के 50 साल के बाद भी वैसे ही चल रहा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला में व्यवस्था क्या की थी कि अगर अंग्रेजों की सरकार चाहे तो जंगल कट सकता लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटने की कोशिश करे तो उसको अंग्रेजी सरकार सजा देती और बहुत आसानी से पेड़ काटने वाले को फांसी की सजा इस देश में दी जाती थी अंग्रेजों के जमाने में तो अंग्रेजों की सरकार तो जंगल कटवाती थी लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटे तो उसको सजा दी जाती थी वही कानून आज भी इस देश में चल रहा है अगर आप चाहें तो अपनी सोसाइटी के सामने लगा हुआ पेड़ काट नहीं सकते अगर आपने काट दिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से तो आपके ऊपर केस चलेगा और दूसरी तरफ भारत सरकार चाहे तो लाखों करोड़ों पेड़ काटने के लिए लाइसेंस दे सकती है विदेशी कंपनी और वो मिला हुआ आप इस देश में एक पेड़ काट नहीं सकते लेकिन हिंदुस्तान में कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती हैं एक विदेशी कंपनी है उसका नाम है आईटीसी ये कंपनी सिगरेट बनाती है इसकी सिगरेट जो सबसे ज्यादा बिकती है उसका नाम है विल ऐसी चौदह पंद्रह सिगरेट इस कंपनी की बनती इस कंपनी के कारखाने में जितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सारे देश में इस कंपनी के नब्बे अरब सिगरेट बनती है एक साल और नब्बे अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत पड़ती है क्योंकि तंबाकू तो खेतों से पैदा होती है तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो पेड़ काट कर ही बनता है 500 सिगरेट का कागज बनाने के लिए यह कंपनी एक पेड़ काट देती है और हर साल ये कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काटती उसको लाइसेंस मिला हुआ आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी आपके ऊपर मुकदमा चलेगा कौन सा देश है किस देश में आप रह रहे हैं ये अत्याचारी कानून अंग्रेजों ने बनाया था और चलाया था समझ में आता है लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही चल रहा है कैसे मानेंगे देश आजाद अंग्रेजों ने ऐसे ही साठ में एक कानून बना दिया था पुलिस का कानून इंडियन पुलिस सर्विस नाम की एक सर्विस बनाई थी अंग्रेजों और उसके आधार पर पुलिस का एक्ट बनाया और वो पुलिस का कानून अंग्रेजों ने क्यों लागू किया इस देश में अठारह में क्रांति हो गई थी विद्रोह हो गया और उस क्रांति में क्या हुआ था मंगल पांडे नाम के एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने अंग्रेजों के एक पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया शूट कर दिया क्यों क्योंकि मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस उसको दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए उसमें गाय की चर्बी लगी रहती तो गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस वो मुंह से खोलना उसको लगता था कि इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो तो जो अंग्रेज ऑफिसर उसको वो कारतूस देता था खोलने के लिए उसी अंग्रेज ऑफिसर की उसने हत्या की उसके हाथ में बंदूक होती तो अंग्रेजों की पुलिस परेशान हो गई अंग्रेजों के सिपाही परेशान हो गए मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दी थी बैरकपुर की छावनी में और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई बैरकपुर की छावनी में वैसे ही हिंदुस्तान के गांव गांव में गली गली में क्रांति की आग लगना शुरू हो गई जगह जगह नौजवानों के मंडल खड़े हो गए पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैल गई जगह जगह अंग्रेज पुलिस ऑफिसरों को जलाया गया जगह जगह अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन जला दिए गए थाने जला दिए गए अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चली कि कैसे इस क्रांति को दबाया जाए तो सबसे पहला काम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहस चली तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने क्या किया कि मंगल पांडे एक हिंदुस्तानी आदमी था उसके हाथ में बंदूक थी उस बंदूक से उसने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया सबसे पहला काम यह किया जाए कि जितने हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों की फौज में हैं सबसे बंदूकें छीन ली जाए और उसके बदले उनके हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाए वही डंडा लिए हुए आज भी इस देश का सिपाही घूमता है आप कभी किसी सिपाही से पूछो कि तुम्हारे हाथ में यह डंडा क्यों है उसको मालूम नहीं है कि उसके हाथ में डंडा कौन से कानून के वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया और उसी कानून के बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला और किया कि कोई भी अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर होगा वो अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करेगा या गोली चलाएगा तो उस हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा लेकिन पिटने वाले और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होगा ये एक दूसरा काम उन्होंने किया तो अंग्रेजों के सिपाही फिर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करते और हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाते थे अंग्रेजों के सिपाहियों की गोलियों से जितने हिंदुस्तानी मारे गए कभी किसी अंग्रेज सिपाही को सजा नहीं हुई क्यों क्योंकि उनको राइट टू ऑफेंस था मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था और इसके दो दाखिले मैं दे सकता पहला दाखिला तो वही सांडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था और लाला लाजपत राय की हत्या की थी बाद में सांडर्स के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया अंग्रेजी न्यायालय में तो सांडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया जज ने फैसला क्या सुना जज ने कहा कि सांडर्स को राइट टू ऑफेंस था लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था इसलिए सांडर्स को कोई सजा नहीं मिली दूसरा मुकदमा चला था डायर के ऊपर 1919 के जलियांवाला बाग में 2000 लोगों को गोली से मार दिया था डायर के ऊपर केस चला डायर भी छूट गया आधार क्या था अंग्रेजी पुलिस का कानून जिसमें कहा गया डायर को राइट टू ऑफेंस था मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं इसलिए डायर भी छूट गया और आज आजादी के 50 साल के बाद भी जब जब पुलिस के गोलीकांड होते हैं जब जब पुलिस के लाठी चार्ज होते हैं एक भी पुलिस ऑफिसर का आप मुझे नाम बताइए कि आजादी के 50 साल के बाद उसको कोई सजा मिली हो इस बात के लिए कि उसने इतने लोगों को गोली से मारा अंग्रेजों के जमाने में यह होता था और आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही हो तो कैसे कहें कि अंग्रेजों के जमाने और आज के जमाने में कोई फर्क है के लोग गोली चार्ज करते हैं गोली मारते हैं चलाते हैं मर जाते हैं लोग लाठी चार्ज करते हैं हमारे जैसे लोगों पर हम घायल होते हैं तो भी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई केस नहीं बनता क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून है वही इस देश में आजादी के पचास साल के बाद भी चलता कैसे कहेंगे देश आजाद अठारह सौ साठ में ऐसे ही अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट और उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के नाम पर एक कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई और उस कलेक्टर का काम क्या था गांव गांव के लोगों से जबरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करता था लगान वसूलता और गांव गांव के लोगों को मार पीट कर उनका लगान वसूला किया जाता था वही कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों ने बनाई थी अठारह सौ साठ में वही आज भी चलती है इस देश में उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के कानून का नाम बस इतना ही बदला गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर दिया गया बाकी सब कुछ वही है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता किताबें भी उनको वही पढ़ाई जाती हैं जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाई जाती है सिलेबस भी उनका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता है अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी एक अंग्रेज की लिखी हुई जिसका नाम था जेम्स मिल जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी वही जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के जमाने में आई थी ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती थी वही आजादी के पचास साल के बाद आज भी पढ़ाई जाती और वो history of British India James Mill ने बहुत तोड़ मरोड़ कर बहुत ही डिस्टॉर्टेड रूप में लिखी है वही हिस्ट्री हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि असली इतिहास वही है जो वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का लेकर दुर्भाग्य तो ये है कैसे कहें कि देश आजाद है अंग्रेजों ने इस देश में अपनी एक न्याय पद्धति चलाई उस न्याय पद्धति को चलाने के लिए मैकॉले नाम का एक अधिकारी भेजा गया मैकॉले के बारे में शायद आप जानते होंगे कि उसने हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति लाई अंग्रेजी शिक्षण पद्धति के अलावा मैकॉले ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी न्याय पद्धति भी स्थापित की और अंग्रेजी न्याय पद्धति के लिए मैकॉले ने सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता ये इंडियन पीनल कोड आज से 140 साल पुराना है जो आज इस देश में चल रहा है मैकोले ने बनाया था इंडियन पीनल कोड का फर्स्ट ड्राफ्ट वही इंडियन पीनल कोड आज भी इस देश में चल रहा है जो मैकोले के जमाने का बनाया और 140 साल पुराने कानून के आधार पर अंग्रेज इस देश में न्याय करते थे उसी 140 साल पुराने कानून के आधार पर इस देश में आज न्याय किया जाता है उसी तरह से अंग्रेजों ने सीआरपीसी बनाया था और सीपीसी बनाया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और उन्हीं के आधार पर इस देश में सारे न्यायालय चलते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेज है उनका दुर्भाग्य यह है कि वो हिंदुस्तान में गलती से पैदा हो गए मैं आपसे सच कह रहा हूं उनका बस चले तो वो इम्पोर्टेड मम्मी पप्पा लाके पैदा होते हाँ उनको वीजा नहीं मिलता वरना वो एक मिनट हिंदुस्तान में रहने को तैयार है ऐसे गुलाम मानसिकता वाले इस देश में आपको एक नहीं दसियों हजार लाखों लोग मिल जाएंगे जो पैदा होते हैं इस देश में खाते इस देश की हैं बजाते फिर अमरीका की हैं और यूरोप की और फिर ऐसे ही लोगों के मम्मी पप्पा घर से कहते हैं मेरा बेटा अमरीका में उनको कहते हुए शर्म नहीं आती कि इस देश के साथ गद्दारी करके अपने बच्चों को अमेरिका भेजते और फिर गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में मेरा बेटा यूरोप इनकी गर्दन पकड़कर पूछना चाहिए कि तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था क्या या तुम्हारा बेटा यूरोप में पैदा हुआ हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ यहां का पैसा खर्च किया लाखों लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ और उसके बाद चला गया अमरीका में और यूरोप में जब पैसा वापस करने का समय आया तो अमरीका पहुंच गया यूरोप पहुंच गया ऐसे गद्दारों के मम्मी पप्पा गर्व से कहते हमारा बेटा अमरीका में मैं कभी कभी कहता हूं कि शर्म करिए कि आपका बेटा अमरीका में ये गर्व करने की बात नहीं है गौरव की बात नहीं है किसी दिन वो आपको भी ठुकरा देगा हो सकता है अमेरिका में किसी मम्मी को तलाश ले पप्पा को तलाश ले जो अपनी मातृभूमि को ठुकरा सकता है वो अपनी मां को भी ठुकरा देगा क्योंकि मातृभूमि और मां में कोई फर्क नहीं होता आप उसको अच्छे नहीं लगेंगे कोई अमरीकी मम्मी उसको अच्छी लग जाएगी तो वो तो कहेगा कि यही मेरी मां क्योंकि ऐसे गुलाम लोगों की कमी थोड़ी है मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो दुर्भाग्य से मेरे दोस्त हैं शरीर से हिंदुस्तानी है दिमाग से अंग्रेज है वो क्या कहते हैं वो कहते हैं राजीव भाई अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो इस देश में अं- न्याय पद्धति नहीं आती माने अंग्रेज आए तो न्याय आया अंग्रेज नहीं आते तो कभी न्याय ही नहीं होता इस देश में तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अक्सर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि जब अंग्रेज आए तो कौन सा न्याय मिला और जब अंग्रेज नहीं थे तो इस देश में कौन सा न्याय मिलता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ही कहानी एक बार उसके राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया एक छोटा सा बच्चा था दो महिलाएं एक मां कहती थी ये मेरा है दूसरी मां कहती थी मेरा दोनों का झगड़ा राजा के दरबार में गया राजा ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई जुडिशियल काउंसिल के सामने वो मुकदमा पेश हुआ और उस मुकदमे में राजा ने एक मां से कहा कि तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा तो एक मां खड़ी हो गई उसने सिद्ध कर दिया ये मेरा बच्चा फिर उसने दूसरी मां से कहा कि अब तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा दूसरी मां खड़ी हो गई उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा राजा धर्म संकट में पड़ गया कौन असली मां है कौन नकली मां है कैसे फैसला किया उसने कहा तलवार ले और इस बच्चे को आधा आधा काट आधा एक मां को दे दो आधा दूसरी मां को दे दो जैसे ही तलवार मंगाई और बच्चे को काटने के लिए उठाई वैसे ही असली मां खड़ी हो गई क्योंकि असली मां अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती तो उसने कहा कि नहीं नहीं काटिए मत बच्चे को ये दूसरे को दे दीजिए कम से कम जिंदा तो रहेगा राजा को पता चल गया कि यही इसकी असली मां है तो उसने उस बच्चे को असली मां को सौंप दिया इस पूरे मुकदमे का फैसला करने में मुश्किल से ढाई मिनट लगा राजा और अगर इसी केस को लेकर आज आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट से कम 20 साल लग जाएंगे ये फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन असली माँ है और कौन नकली माँ है और हो सकता है 20 साल में दोनों माताएं मर जाए बच्चा भी मर जाए लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा जो तो जब अंग्रेज नहीं थे इस देश में तो कौन सी न्याय पद्धति थी कि ढाई मिनट में न्याय मिलता था और जब अंग्रेज आए तो कौन सी न्याय पद्धति लेकर आए जहां 20 साल में भी न्याय नहीं मिलता मुकदमे दर मुकदमे चलते ही चले जाते हैं चलते ही चले जाते हैं चलते ही चले जाते हैं ये अंग्रेजों की बनाई हुई न्याय पद्धति है जिसके तहत उन्नीस के भोपाल हत्याकांड में दस हजार लोग मर गए एक ही रात में और पिछले चौदह साल में लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं लेकिन आज तक फैसला नहीं हो पाया कि उसका जिम्मेदार कौन ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति अगर हिंदुस्तानी न्याय पद्धति होती तो सन उन्नीस सौ चौरासी में ही फैसला हो गया होता कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी लेकिन अंग्रेजों की न्याय पद्धति है कि हो सकता है और बीस साल ये समय गुजर जाए आप भूल जाएंगे कि कभी भोपाल नाम का भी कोई हत्याकांड इस देश में हुआ मैं मैकॉले कहा करता था कि जिस न्याय पद्धति को मैं हिंदुस्तान में ला रहा हूं अगर ये एक बार लागू हो गई तो इस देश की प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा मुकदमे चलते रहेंगे कभी न्याय नहीं मिलेगा और मुकदमे चलते रहेंगे तो किस आधार पर आईपीसी के आधार पर सीआरपीसी के आधार पर सीपीसी के आधार पर कानूनों के आधार पर कभी भी न्याय नहीं होता कानूनों के आधार पर मुकदमे के फैसले होते हैं कानून के आधार पर न्याय मिलता तो अंग्रेजों की और यूरोप की कौम अपने यहां न्याय दे पाती कभी न्याय नहीं मिला यूरोप की कौम को अंग्रेजियत की कौम क्योंकि कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं कभी न्याय नहीं मिलता तो हमने इन सारे स्थानों को न्यायालय कहना क्यों शुरू किया कहीं भी न्याय तो मिलता नहीं हर जगह तो कानून के आधार पर मुकदमे के फैसले होते हैं तो हम इनको न्यायालय क्यों कहें इनको तो कायदालय कहना चाहिए या कानून आलय कहना चाहिए क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं न्याय कहां मिलता जैसे मैं उदाहरण दू सोलह साल से ऊपर का अगर बैल है तो उसको काट देना चाहिए यह कानून तो हो सकता है लेकिन न्याय कहां है क्योंकि अगर सोलह साल से ऊपर मेरी मां है मेरे बाप है मेरे बुजुर्ग हो गए हैं उनको काट देना चाहिए क्या क्योंकि गाय बूढ़ी हो गई है क्योंकि बैल बूढ़ा हो गया इसलिए काट देना चाहिए तो ये न्याय तो नहीं हुआ कानून के आधार पर फैसला हो गया कि बूढ़े गाय बैल को काट देना चाहिए न्याय कहां है ये न्याय में और फैसले में बहुत फर्क है तो यहां तो कानून के आधार सकते न्याय नहीं मिलता तो मैं कहता हूं कि इन सब जगहों के नाम बदलने चाहिए आप देखते हैं जगह जगह न्यायालय लिखा हुआ है वो सब हटा के कायदालय लिखना चाहिए या कानून आलय लिखना चाहिए न्याय होगा रहा है अन्याय ही अन्याय तो हो रहा और अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे अपने अधिकारियों को छोड़ने के लिए अंग्रेजों के जमाने में इस देश में भयंकर करप्शन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे रॉबर्ट क्लाइव सबसे करप्ट अंग्रेज ऑफिसर था रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव जितने समय इस देश में रहा उतने समय में उसने 1500 करोड़ रुपए के घोटाले किए और उस 1500 करोड़ के घोटाले के बावजूद रॉबर्ट क्लाइव छूट गया क्यों कानून ऐसे थे अंग्रेजों के जमाने वही आज भी है कि करोड़ों करोड़ों के घोटाले करने वाले नेता भी इस देश में छूट जाते हैं क्यों क्योंकि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं कानूनों के आधार पर अंग्रेजों के ऑफिसर छूट जाते थे उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के सारे बड़े नेता छूट जाते हैं चाहे जितने बड़े से बड़ा करप्शन करें और आप में से तो बहुत लोग भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ आज की बात तो छोड़ दीजिए आज से 20, 25, 30 साल पहले एक नागरवाला कांड हुआ था किसको याद है कि नागरवाला को क्या सजा हुई एक मुद्रा कांड हुआ था किसको याद है कि मुद्रा को कौन सी सजा हुई और ये दोनों आदमी पंडित नेहरू के खास आदमी माने जाते थे नागरवाला और मुंदड़ा लेकिन दोनों कोई सजा नहीं हुई और इतने बड़े घोटाले किए थे उस जमाने में इन लोगों ने लेकिन कोई सजा नहीं हुई क्यों नहीं हुई कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए जिसमें अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे उसी कानून में ये छूट टीटी कृष्णामाचारी का घोटाला हुआ कितने लोगों को याद है कि टीटी कृष्णामाचारी को कोई सजा हुई थी बस इतना हुआ था कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था बाकी कोई सजा नहीं हुई थी और ऐसे तमाम घोटाले मैं आपको याद दिला सकता हूं सिर्फ आज के नहीं उस जमाने में जब हिंदुस्तान में माना जाता था कि यह पहली सरकार है और यह पहली सरकारें करप्शन नहीं करती उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं आज की तो बात छोड़ दीजिए उस जमाने में हिंदुस्तान में दो बड़े घोटाले हुए थे एक हुआ था चेक पिस्टल कांड और दूसरा हुआ था जीप खरीदने का कांड चेक पिस्तौल ऐसी खरीदी गई थी जो चलती नहीं थी और करोड़ों डॉलर उसका पेमेंट कर दिया गया और जीपें ऐसी खरीदी गई थी आर्मी के लिए उन जीपों में कोई दम नहीं था वो जीपें टूट जाती थी बात और इन दोनों बड़े घोटालों में हिंदुस्तान के तीन बड़े मंत्री फंसे हुए थे लेकिन उनमें से कभी किसी को सजा नहीं हुई आज भी वही हो रहा है हवाला घोटाले में कितने लोग फंसे सब छूट गए हैं आधार क्या था अंग्रेजों के जमाने के जिस कानून के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे उसी कानूनों के आधार पर ये सब छूट रहे हैं तो करप्शन तो हो नहीं है क्योंकि अंग्रेजी सरकार जानबूझकर ऐसे कानून डालकर गई है जिन कानूनों के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर्स को करप्शन करने की छूट मिलती थी उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के राजनेताओं को आज करप्शन करने की छूट मिली करप्शन बंद कहते हैं जब तक वो कानून चलेंगे जब तक ऐसी व्यवस्था चलेगी तब तक करप्शन दूर कैसे हो सकता ऐसी न्याय की पद्धति उन्होंने डाली जो सरासर अन्याय कर रही है और हम पचास साल से ढोते चले जा रहे हैं करोड़ों करोड़ों मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं कभी फैसले नहीं होते हैं उनके कौन सी न्याय पद्धति है कैसी आजादी है ऐसे ही अंग्रेजों ने इस देश को बर्बाद करने के लिए शिक्षण व्यवस्था चलाई मैं पहले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता दोस्त के दो कर्मों के लिए पहला काम जो उसने किया हिंदुस्तानी न्याय पद्धति का नाश करके अंग्रेजी न्याय पद्धति लाई और दूसरा नाश मैकॉले ने किया था हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति का नाश करके अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में उसने चलाई और अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति जो मैकॉले ने चलाई थी मैं आपको दुर्भाग्य की एक दूसरी बात बताऊं कि मैकॉले के जमाने में वो चल नहीं पाई मैकॉले ने जितने कॉन्वेंट स्कूल खोले इस देश में अंग्रेजी के प्रचार के लिए एक भी नहीं चला सब बंद हो गए लेकिन मैकॉले के जाने के बाद उन्नीस से उन्नीस के बीच में हजारों कॉन्वेंट स्कूल इस देश में चल रहे हैं मैकॉले की आत्मा चला रही है शायद उन स्कूल और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल है जरा सुनिए बंबई में मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल देखा है जिसका नाम है बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल बजरंग बली का कॉन्वेंट स्कूल से क्या लेना देना है लेकिन है बंबई में हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको पता चले गणपति बप्पा कॉन्वेंट मैकोले तो मर गया लेकिन मैकोले की आत्मा जिंदा अठारह सौ पैंतीस में मैकोले ने एजुकेशन ड्राफ्ट तैयार किया और उसकी नीति बना उस नीति में उसने किया क्या था अंग्रेजी के स्कूल इस देश में तब चलेंगे जब हिंदुस्तान में संस्कृत के जो गुरुकुल चलते हैं उनको बंद कर दिया जाए ये मैकोले कहा था मैकोले ने एक दूसरी बात और कही वो ये कहता था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है जो भारत की संस्कृति है उसका न्यूक्लियस कौन है केंद्र बिंदु कौन है तो वो कहता था गुरुकुल है क्यों तो वो कहता था कि गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं पढ़कर बाहर जाते हैं समाज के नागरिक बनते हैं गुरुकुलों से जो संस्कार लेकर जाते हैं उसी संस्कार के आधार पर समाज चलता है और उसी से संस्कृति बनती है इसलिए गुरुकुल हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति के केंद्र बिंदु हैं इन गुरुकुलों को नाश करना बहुत जरूरी है ताकि अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में चले तो उसने क्या किया था एजुकेशन एक्ट बनाया पहले एजुकेशन ड्राफ्ट बनाया फिर एजुकेशन ड्राफ्ट के आधार पर एजुकेशन एक्ट बनाया उस एजुकेशन एक्ट में उसने क्या किया कि हिंदुस्तान में जो संस्कृत के गुरुकुल चलते थे उनको पाबंदी लगा दी मैं कॉलेज कानून से पाबंदी लगा और संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्यों को बंद कर दिया उन पर पाबंदी लगा और संस्कृत के गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिलेगी पच्चीस पच्चीस साल वो संस्कृत के विद्यालय में पढ़ते रहे उनको डिग्री नहीं मिलेगी और पांच छह साल अगर अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ लें तो उनको डिग्री मिल जाएगी ऐसी व्यवस्था उसने बनाई और गांव गांव में अंग्रेजी का प्रचार करवाना शुरू किया और उस अंग्रेजी के प्रचार के लिए उसने एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को खड़ा किया था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय हो सकता है अब तक आप इतिहास में पढ़ते आए हो कि राजा राम मोहन राय ने देश का बड़ा सुधारा किया लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने देश का जितना सत्यानाश किया उतना शायद किसी दूसरे आदमी ने क्योंकि ये राजा राम मोहन राय नाम का ही व्यक्ति था जिसने लॉर्ड विलियम वेंटिंग के साथ मिलकर हिंदुस्तान के गांव गांव में अंग्रेजी स्कूलों को खुलना चाहिए इसका प्रचार किया और राजा राममोहन राय था कौन हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी इतिहास लिखा है ना जेम्स मिल जैसे लोगों ने उस अंग्रेजी इतिहास में राजा राममोहन राय का स्थान बहुत ऊंचा है क्यों क्योंकि अंग्रेजों की मदद करता था अंग्रेजों का एजेंट था इसलिए अंग्रेज उसी के इतिहास का गुणगान कर रहे और आज भी बहुत सारे ऐसे कथित तथाकथित इतिहासकार हैं जो इन्हीं का नाम ले लेके बार बार कहते हैं कि राजा राममोहन राय ने तो सुधारा किया है सुधारा नहीं सत्यानाश किया है और अंग्रेज क्या कहा करते थे अंग्रेज कहते थे कि अगर हम गांव गांव जाके अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे तो भारतीय जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी इसलिए एक हिंदुस्तानी एजेंट खड़ा करो उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाओ तो राजा राममोहन राय वो व्यक्ति गांव गांव में गली गली में जिले जिले में प्रचार करने का काम अंग्रेजी शिक्षा का उस आदमी ने किया और उसके बाद अंग्रेजों ने स्कूल खोले कॉन्वेंट स्कूल लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि अंग्रेजों के जमाने तक इस देश में कॉन्वेंट स्कूल सफल नहीं हो पाए जितना अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में सफल हो और मैं यही कहता हूं कि मैकौले तो मर गया लेकिन मैकौले की आत्मा हम सबके अंदर बैठी हुई है और वो मैकौले की आत्मा ही बैठी हुई है जब मैं लोगों से सुनता हूं और बात करते हैं लोग राजीव भाई हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है कॉन्वेंट में पढ़ता है बड़े गर्व से कहते हैं कि राजीव भाई हमने तो बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में करवा दिया मैंने कहा काय को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में तो तर्क क्या देते हैं कि राजीव भाई कॉन्वेंट में पढ़ने से बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं तो मैंने कहा स्मार्टनेस की आपकी परिभाषा क्या है तो बहुत से लोग बता नहीं पाते कि स्मार्टनेस का माने क्या है तो कुछ लोग कह देते हैं कि कुछ नहीं आता अरे राजीव भाई कम से कम इतना तो आ जाता है कि वो टाई लगाना सीख जाते हैं तो मैं पूछता हूं कि आप अकल के इतने दुश्मन हैं और आपके इतने अंधे हैं आपने कभी सोचा है कि ये टाई क्यों लगाते थे अंग्रेज यूरोप में टाई क्यों लगाई जाती है इंग्लैंड में टाई क्यों लगाई जाती है क्यों उन्होंने टाई लगाने की परंपरा शुरू की अपने देशों में इसलिए उनके देशों में टाई लगाई जाती है क्योंकि यूरोप के सभी देशों में इंग्लैंड भी उसमें शामिल है भयंकर सर्दी पड़ती है और इतनी सर्दी पड़ती है कि एक साल में छह महीने तक सूरज नहीं निकलता सात आठ महीने तक सूरज नहीं निकलता तो जिन देशों में भयंकर सर्दी पड़ती है उन लोगों को बहुत सर्दी जुकाम होता रहता है और जब बार बार सर्दी होती है नाक चलती है तो जेब से रूमाल निकाल निकाल के नाक पोछनी पड़ती है तो उन्होंने सुविधा के लिए एक रूमाल गर्दन में बांध लिया ताकि बार बार उसके नाक इसलिए उन्होंने अपने देश में टाई चलाई अंग्रेजों ने इसलिए टाई चलाई अपने देश में और टाई का मतलब ही यही होता टाई का मतलब होता है गर्दन के चारों तरफ लटक, लटकने वाला एक कुमा जिसका इस्तेमाल क्या है नाक पहुंचने से ज्यादा और क्या इस्तेमाल उसका तो इंग्लैंड के लोग उसको लटकाते हैं समझ में आता है यूरोप के लोग लटकाते हैं समझ में आता है क्योंकि बहुत सर्दी जुकाम होता है बहुत ठंडी पड़ती है हमने कहा है को तो लटकवा दी अपने बच्चों के गर्दन में यहां तो साल में नौ महीने गर्मी पड़ती है और साल में नौ महीने जिन देशों में गर्मी पड़ती है उन देश के बच्चों के शरीर थोड़े खुले खुले रहने चाहिए हम तो कस के टाई बांध के उनका गर्दन भी बंद कर देते लेकिन ये बेवकूफी है ये इडियोसिटी जो अंग्रेजियत के स्कूलों में तैयार है और दूसरी इडियोसिटी क्या आई है कि इस देश के लोग थ्री पीस सूट और पहन लेते हैं ऊपर से टाई लगा भयंकर गर्मी पड़ती है साल में नौ महीने गर्मी पड़ती और मैं जानता हूं कि सूट पहनने वालों को भी अंदर से पसीना आता होगा लेकिन जब पसीना आता है तो करते क्या है एसी चला के बैठ जाते हैं ये नहीं कि सूट उतार के फेंक दे लेकिन एसी चला के बैठे के सूट पहन दिमाग की गुलामी देख और इस देश की अंग्रेजियत की गुलामी का एक दूसरा निशान और हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लड़कों की जब शादियां होती हैं तो थ्री पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चलते घोड़े का और थ्री पीस सूट का क्या रिश्ता है टाई और थ्री पीस सूट के पहनकर घोड़े पे नहीं चढ़ा जाता घोड़े पे चढ़ाने की पोशाक ही दूसरी होती है लेकिन दिमाग की गुलामी इतनी जबरदस्त है कि उसी को पहन के घोड़े पे चढ़ते एक बार मैं मेरे एक दोस्त की शादी में गया तो मैंने कहा देख तू मुझे अपनी शादी में मत ले चल नहीं तो हंगामा हो जाएगा कहने लगा यार चल तो सही मैंने कहा अगर तेने सूट पहना और टाई लगाई तो फिर समझ लेना तो पहले तो उसने मना कर दिया लेकिन बाद में वही पहन के चढ़ गया मैंने कहा क्यों मैंने तो मना किया था कि नहीं पहनूंगा कहने लगा राजीव भाई क्या बताऊं अगर मैं थ्री पीस सूट और टाई नहीं लगाऊंगा तो मेरी बीवी मुझसे ब्याह नहीं करेगी तो मैंने कहा तैने अपनी बीवी से यह पूछ लिया है कि तू अगर थ्री पीस सूट और टाई पहनेगा तो तेरी बीवी स्कर्ट पहनने को तैयार है यूरोप की परंपरा में अगर पुरुष थ्री पी सूट और टाई पहनता है तो महिला उसके साथ स्कर्ट पहन के घूमती है तो तू अपनी बीवी से पूछ कि वो साड़ी पहनना छोड़ दे स्कर्ट पहनकर घूमेगी तेरे साथ जन लगा यार ये तो मैंने सोचा नहीं मैंने कहा फिर ये आधा आधा चक्कर क्या है तू तो हो रहा है अंग्रेज और तेरी बीवी को हिंदुस्तानी रखेगा ये खिचड़ी तो कभी नहीं पकने वाली या तो बीवी भी तेरी अंग्रेज हो जाए तू भी अंग्रेज हो जाए तब तो समझ में आता या दोनों हिंदुस्तानी हो जाए तब समझ में आता ये आधा आधा चक्कर तो बड़ा गड़बड़ वाला लेकिन है इस देश में पता नहीं पत्नियां कैसे बर्दाश्त करती हैं अपने पतियों को कि वो थ्री पीस सूट और टाई लगा के घूमते हैं लेकिन खुद साड़ी पहनती है कभी मिडी नहीं पहनती कभी स्कर्ट नहीं पहनती लेकिन खुद साड़ी पहनती है पतियों को अंग्रेज बनाने को सब तैयार है ये सिर्फ मानसिक गुलामी है और कुछ नहीं स्मार्टनेस कभी सूट बूट से नहीं आती स्मार्टनेस टाई लगाने से नहीं आती स्मार्टनेस की परिभाषा तो हिंदुस्तान में कुछ और है दिमाग की बुद्धि से आती है ज्ञान से आती है कपड़े पहनकर अगर किसी आदमी का परिचय करना आपने शुरू किया तो जिंदगी में हमेशा धोखा खाएंगे क्योंकि इस देश में जितने कपड़े त्यागे हैं वो बहुत बड़ा हुआ है फकीर जो इस देश में है वो ऊंचे माने जाते हैं अगर कपड़ा ही पहनने वाले लोगों का आप पहचान करना शुरू करेंगे तो भगवान महावीर स्वामी में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा अगर कपड़े पहनने वालों की पहचान करेंगे तो कबीर में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा रैदास में कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस देश की तो परंपरा है कि जो फकीर हुआ है वो इस देश में ऊंचा हुआ है जिसने त्याग किया है वो ऊंचा हुआ है कपड़े पहनने वाले इस देश में कभी ऊंचे नहीं हुए भगवान राम भी जब तक राजकुमार थे और महल में रहते थे कोई नहीं जानता था उनको और महल त्याग दिया कपड़े छोड़ दिए वन वन घूमे चौदह साल तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए सिद्धार्थ नाम का राजकुमार जब महल में रहता था कोई नहीं जानता था महल छोड़कर निकल गया तपस्या के रास्ते पर कपड़े भी छोड़ दिए और सब छोड़ दिया तो भगवान हो क्यों हो कपड़े पहनने से आदमी की पहचान नहीं होती महात्मा गांधी भी थ्री पी सूट और टाई लगाते थे नौकरी करते थे जोहान्सबर्ग स्वर्ग उसके बाद महात्मा कब हुए जब लंगोटी धारण की थी और एक ही लंगोटी में पूरा शरीर लपेटते थे तब महात्मा हुए थे थ्री पी सूट और टाई लगा के महात्मा नहीं ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो आप कपड़े में किसी की स्मार्टनेस तलाशते स्मार्टनेस कपड़े में नहीं होती है दिमाग में होती है बुद्धि में होती है कर्म में होती है चरित्र में होती है स्मार्टनेस इसमें देखी जाती है हो सकता है चरित्र से बर्बाद हो इस देश में तो दुर्भाग्य यही कि जो चरित्र से बर्बाद है लंपट है लुच्चा है गुंडा है बस बढ़िया थ्री पीस सूट और टाई लगाए हुए है तो जय जयकार है और हो सकता है दिखने में फकीर जैसा लगता हो बेवकूफ जैसा लगता हो उल्टे सीधे कपड़े पहनता हो लेकिन दिमाग उसका किसी सातवें आसमान से भी ऊपर चलता हो तो आप तो उसको बुद्धू कर देंगे सबसे बड़ा धोखा तो आप यही खा रहे हैं कि किसी के कपड़े की पहचान से आप स्मार्टनेस तय कर रहे हैं इसलिए ये बेवकूफी में से बाहर निकल आइए आपके बच्चे टाई लगा के स्मार्ट नहीं बन रहे ईडियट बन रहे और ये अंग्रेजियत की ही देन है आपके देश को कि जिस देश में साल में नौ महीने गर्मी पड़ती हो उस देश के लोग मोजे चढ़ाकर जूते पहने ये अंग्रेजियत की देन और क्या होता है जब गर्मी पड़ती है तो पैर में पसीना आता है पैर में पसीना आता है तो मोजा उससे भीगता है फिर उसके बाद जब मोजा उतारा जाता है तो पूरे घर में उसकी बदबू आती है लेकिन मोजा पहनना बंद नहीं करते वो चढ़ाए चढ़ाए घूमते रहते हैं कहां से आई है ये गुलामी इसी अंग्रेजियत के सिस्टम में से इसी कॉन्वेंटियन एजुकेशन में से तो आपके बच्चे स्मार्ट बनने नहीं जा रहे हैं ईडियट बनने जा रहे हैं उन अंग्रेजी के स्कूलों में जवाब दे बहुत सारे लोग मुझको तर्क दे देंगे राजीव भाई अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज और मैं उनको कहता हूं कि इस समय दुनिया में दो देश हैं और 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है एक देश ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी चलती नहीं दुनिया के 150 देशों में अंग्रेजी चलती तो मैं मानता कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है मुश्किल से बारह देशों में अंग्रेजी चलती और एक देशों में अंग्रेजी चलती नहीं उन देशों की अपनी मातृभाषाएं चलती इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है अंग्रेजी कभी कभी लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है मुझे बहुत लोग तर्क देते हैं कि राजीव भाई जो शब्दावली अंग्रेजी में है वो कहीं किसी भाषा में हो नहीं सकती उससे बड़ा बेवकूफ में को मानता नहीं क्योंकि उन्होंने कभी यह गिनने की कोशिश नहीं की कि अंग्रेजी में शब्द कितने कुल मिलाकर अंग्रेजी में कितने शब्द हैं मुश्किल से अंग्रेजी में इस समय कुल मिलाकर मूल शब्द ओरिजिनल शब्द बारह हजार हैं बस और आपको मालूम है गुजराती में कितने शब्द हैं मूल शब्द आज की तारीख गुजराती में चालीस हजार शब्द हैं तो गुजराती बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी मराठी में कितने हैं मराठी में अड़तालीस हजार शब्द हैं अंग्रेजी में मात्र बारह हजार है अंग्रेजी से चार गुना ज्यादा मराठी में और अंग्रेजी से साढ़े तीन गुना ज्यादा गुजराती में और हिंदी में कितने बहत्तर हजार शब्द हैं हिंदी में और संस्कृत में कितने डेढ़ लाख शब्द हैं संस्कृत और अंग्रेजी को मैं दुनिया की सबसे रद्दी भाषा मानता पता है क्यों अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है क्यों नहीं है सब काका भी अंकल ताऊ भी अंकल मामा भी अंकल मौसा भी अंकल फूफा भी अंकल और फूफा के फूफा भी अंकल सब अंकल काकी भी आंटी मौसी भी आंटी मामी भी आंटी फूफी भी आंटी फूफी की फूफी भी आंटी सब आंटी आप जरा मुझे बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क है कि नहीं है मौसी में और मामी में फर्क है कि नहीं है क्या आप मौसी को मामी बना सकते हैं या फूफा को मौसा बना सकते हैं या मौसा को फूफा बना सकते हैं ये अंग्रेज तो बना लेते हैं सब उनकी अंकल हैं सब उनकी आंटी पता है क्यों क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं है अपने रिश्तों को कहने के लिए और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं होते वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है और ये अंग्रेजी कैसी बेवकूफी की भाषा है आप इंग्लैंड में जाइए कोई आपसे कहेगा टुडे टुडे माने आज टीओडीए वाई और आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में तो आपको कहेगा टुडा टुडा टुडा मतलब क्या टीओ टू और डीआई e, डाई डाई माने मरने के लिए लेकिन आपको सुनाई देगा टुडा है टुडा है टुडा है मतलब क्या है ब्रिटेन में एक प्रोनाउंसिएशन ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रोनाउंसिएशन कनाडा में चले जाइए तीसरा प्रोनाउंसिएशन जिस भाषा के शब्दों के उच्चारण बदलते हो एक देश से दूसरे देश में वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा और इसलिए भी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी कि अंग्रेजी की व्याकरण कभी भी एक जैसी नहीं रहती अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग कभी भी एक जैसी नहीं रहती सत्रहवीं शताब्दी में दिस लिखा जाता था टी आई एस आज लिखा जाता है टी एच आई एस क्यों सत्रहवीं शताब्दी में यू लिखा जाता था T H O U thou आज लिखा जाता है वाई ओ यू क्यों जो सत्रहवीं शताब्दी में वही संस्कृत में हजार साल पहले जो लिखा जाता था वही हजार साल बाद लिखा जाता और अगले हजार साल बाद भी वही लिखा जाएगा ये अंग्रेजी एक ऐसी घनचक्करी भाषा है जिसमें हर बार शब्द के स्पेलिंग बदलते हैं हर बार शब्दों के व्याकरण बदलते हैं इस भाषा को कैसे हम कहें कि ये दुनिया की अच्छी भाषा और सबसे आखिरी बात अंग्रेजी इसलिए भी बर्बादी भाषा है कि ये आपकी मौलिक चिंतन की शक्ति को रोक देती है आपको मालूम नहीं है जब आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनके ऊपर कितना कष्ट होगा आप अगर आपके घर में गुजराती बोलते हैं मराठी बोलते हैं और आपके बच्चे को कोई सवाल दीजिए गुजराती में और मराठी में वो जितनी जल्दी याद करेगा अगर उसी सवाल को अंग्रेजी में दे दीजिए तो उससे छह गुना ज्यादा समय लगेगा उसी सवाल को याद करने अगर गुजराती और मराठी में कोई बच्चा एक घंटे में सवाल याद कर सकता है तो वही सवाल अंग्रेजी में छह घंटे में उसको याद होगा और याद नहीं होगा वो रटेगा उसको और रटने के बाद इम्तहान में लिख आएगा इम्तहान में लिख कर आने के एक दिन बाद पूछ लीजिए कि तुमने कल क्या लिखा उसको कुछ नहीं मालूम उसने कल क्या लिखा कक्षा आठ में जिस बच्चे ने अभी छमाही इम्तहान दिया तीन महीने बाद पूछ लीजिए क्या लिखा है तुमने उसको कुछ नहीं मालूम कक्षा सात में वो क्या पढ़कर आया है उसको कुछ भी याद नहीं है कक्षा सात में उसने क्या पढ़ा क्यों क्योंकि आपने अंग्रेजी के बहाने उसको पोपट बना दिया तोता बना दिया रट्टू रटो रटो रटो याद नहीं कर रहा रट रहा और रटी हुई चीज कभी भी याद नहीं होती वो हमेशा भूलेगा बच्चा तो आप तो अपने बच्चे को गधा बना रहे हैं इंटेलिजेंट बनाने के नाम पर आप उसको गधा बना रहे और कैसा गधा बनाते हैं ये अंग्रेजी स्कूल वाले लोग उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं मेरा बचपन ऐसे ही स्कूल में बीता और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मेरे माँ और पिताजी को मानता हूं कि अपनी झूठी शान के लिए उन्होंने मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा उसका नतीजा क्या निकला मैं एक ही उदाहरण से समझाता हूं मैं जब कक्षा नौ में पढ़ता था अंग्रेजी के स्कूल में तो मुझे गणित पढ़ाया जाता था मार मार के मुझे दो फॉर्मूले याद कराए गए एक्स प्लस वाई का whole square is equal to x square plus two x y plus y square x minus y का whole square is equal to x square minus two x y plus y square अब क्या होता था कि रटने के चक्कर में मैं प्लस का माइनस करता था माइनस का प्लस करता था और हमेशा घन चक्कर होता था तो फिर मेरी पिटाई होती मार खाता था बेजती होती और एक बार ये हालत हो गई कि मेरे माँ बाप ने मेरा ट्यूशन लगा दिया और ट्यूशन लगा दिया छह महीने सब काम बंद करके मैंने ये दो ही फॉर्मूले रटे और छह महीने जिन दो फॉर्मूलों को रटने में मैंने बर्बाद किया आज जिंदगी के इतने साल के बाद मुझे मालूम नहीं कि उनका कहाँ इस्तेमाल करूं क्या इस्तेमाल करूं चीजों के लिए मैंने छह महीने का समय बर्बाद किया बेजती हुई मेरी क्लास में पिटाई हुई मेरी बर्बादी हुई मेरे समय की लाखों लाखों हजारों हजारों घंटे मेरे बर्बाद हो गए टेंशन इतना लिया मैंने दिमाग में उन दोनों का मैं करूं क्या वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरे किसी काम में नहीं आता और इसके विपरीत आपको एक दूसरी बात बताऊं मेरे ही अपने जीवन की मेरी दादी ने मुझको एक पहाड़ा सिखाया एक सवाया डेढ़ गुना ढाई गुना पौने तीन गुना साढ़े तीन गुना चार गुना और ये पहाड़ा मेरे जीवन में हर समय काम में आता जहां भी जाता हूं हर समय मेरी दादी का पढ़ाया हुआ पहाड़ा मुझे काम आता लेकिन मेरे पीएचडी होल्डर अध्यापकों ने जो पढ़ाया वो कभी जीवन में काम नहीं आया तो किसको मैं बड़ा कहूं मेरी दादी ज्यादा पढ़ी लिखी है कि ये पीएचडी होल्डर अध्यापक ज्यादा पढ़े लिखे लेकिन दुर्भाग्य क्या है आज की परिभाषा में मेरी दादी तो साक्षर ही नहीं है क्योंकि वो लिख नहीं सकती इसका माने आपने टेलीविजन पर रोज देखा साक्षर माने क्या है जो का लिख सके जो खा लिख सके जो एबीसी भी लिख सके वो साक्षर और जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ मुझे पढ़ाती है तो साक्षर नहीं और जिन्होंने मुझे साक्षर बना भी दिया वो मेरे जीवन में कभी काम आने वाला नहीं तो मैं कहूं किसको साक्षर किसको साक्षरता की जरूरत है मेरे पीएचडी होल्डर उस अध्यापक को या मेरी दादी को और आपको एक दूसरी राज की बात और बता ज्ञान का डिग्री से कोई रिश्ता नहीं है ये सबसे बड़ी भूल हम करते हैं हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा क्योंकि डिग्री अच्छी मिलेगी डिग्री मिल जाने से ज्ञान नहीं आता और अगर डिग्री मिलने से ही ज्ञान आता तो तुलसीदास को जरूर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना पड़ता जरा बताइए तुलसीदास कौन सी यूनिवर्सिटी में से पीएचडी करके आए तुलसीदास पर आज पीएचडी की जाती है लेकिन तुलसीदास ने खुद कभी किसी पीएचडी होल्डर डिग्री में वहां से काम नहीं किया वाल्मीकि ने कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की थी या भगवत गीता जिन्होंने लिखी व्यास जी ने वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे और आप बताइए दुनिया जहान की सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें भगवत गीता में है कि नहीं है जीवन के एक एक क्षण में जहां हम फंस जाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सारा ज्ञान हमको गीता देती है रामचरित मानस और गीता ये दो ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं रामचरित मानस हमको ये सिखाती है हमेशा कि जीवन में क्या क्या करना चाहिए और गीता ये बताती है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए इतना बड़ा ज्ञान जो पुस्तकें देती हो वो किसी डिग्री होल्डर की लिखी हुई पुस्तकें नहीं और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में इतने डिग्री होल्डर पैदा हो रहे हैं एक दूसरी महाभारत कोई क्यों नहीं लिख देता आज या दूसरी रामायण क्यों नहीं लिखी जाती इस देश में या दूसरी ऐसी कोई कृति क्यों नहीं पैदा हो रही है जो चयी हो और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक लोगों को राह दिखाए और रास्ता दिखाए आज तो बड़े बड़े टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटी टॉपर होने से यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने से कॉलेज की डिग्री मिलने से ज्ञान नहीं आता ज्ञान तो किसी और चीज से आता है चिंतन से आता है मनन से आता है प्रज्ञा पैदा होती है तो ज्ञान पैदा होता है और वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्कूल में जाए बच्चा तभी पैदा हो दुनिया के ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में मैं जानता हूं जो कभी स्कूल गए नहीं लेकिन उनके लिखे हुए नियम सब पढ़ते न्यूटन कक्षा नौ में फेल हो गया और उसके बाद वो स्कूल नहीं गया लेकिन न्यूटन की बनाई हुई तमाम चीजें दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं आइंस्टाइन गया नहीं स्कूल फेल हो गया था उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया और आइंस्टाइन का दिया हुआ फॉर्मूला सारी दुनिया में चलता है क्यों अगर स्कूल से और डिग्रियों से ही ज्ञान मिलता होता तो न्यूटन तो ज्ञानी होता ही नहीं आइंस्टाइन भी अज्ञानी होता लेकिन ऐसा नहीं और हिंदुस्तान में ऐसे तमाम दूसरे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं ज्ञान कभी भी डिग्रियों से नहीं मिलता और ज्ञान और शिक्षा में बहुत फर्क है शिक्षा और विद्या में भी बहुत फर्क है हम लोग हमेशा ये फर्क भूल जाते हैं हम लोग एजुकेशन को ही सब कुछ मान लेते हैं जबकि एजुकेशन का मतलब कुछ भी नहीं और मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी माध्यम की एजुकेशन में तो जितना पढ़ाया जा रहा उसका 95 परसेंट एकदम बेकार है बोगस किसी काम में नहीं आता और आपके बच्चों को मार मार के जबरदस्ती वही पढ़ाया जाता है जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आता मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता हूँ लोग बेचारे अपने बच्चों पे कितना अत्याचार करते हैं बेटा अंकल आए हैं जरा कविता तो सुनाओ तो बेटा शुरू हो जाता baa baa black sheep have you any wool twinkle twinkle little star अब उस बच्चे से पूछ रहा हूँ तुमको मालूम है ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या नहीं अंकल मुझको नहीं मालूम तो काहे को रटवा दिया उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार काहे को रटवा दिया उसको बाबा ब्लैक शीप उसको मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या लेकिन बेचारा रटे हुए सुनाया चला जा रहा कोवट की तरह से तोते की तरह आप अपने बच्चों को ज्ञानी नहीं बना रहे हैं बल्कि उनको गधा बना रहे हैं गधा क्या होता है कभी अपने दिमाग से नहीं सोचता मालिक जो लादता चला जाता है लादता चला जाता है उसी को लेता हुआ चुपचाप बेचारा चलता जाता है आप भी बच्चों के ऊपर जो बस्ता लादते चले जा रहे हैं लादते चले जा रहे हैं लादते चले जा रहे हैं बच्चों का वजन अब बस्ते के वजन से बहुत कम है बस्ते का वजन दो गुना ज्यादा पता नहीं क्या करने वाले हैं आप अपने बच्चों ऐसे नरक में आपने ढकेल दिया है उन बच्चों के दिल की आप स्थिति आप नहीं समझ सकते मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजर चुका हूं इसलिए मुझे मालूम है क्या तकलीफ होती है क्या दर्द होता है आपकी झूठी शान और आपकी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में बच्चे को क्या क्या बर्बाद करना पड़ता है अपने जीवन में और आजकल वो अंग्रेजियत के स्कूल तो ऐसे स्कूल बन गए हैं बिल्कुल बच्चों को जैसे बकरे को हलाल किया जाता है ना वैसे हलाल करते हैं होमवर्क दे दो होमवर्क दे दो होमवर्क दे दो और उस होमवर्क को कराने के लिए फिर आपको ट्यूशन रखवाना पड़ता है अपने बच्चों का और वो ट्यूशन वाला और आपका बच्चा क्या पढ़ता है आपको मालूम ही नहीं मेरी मां को मालूम नहीं होता था कि उसका बेटा क्या पढ़ा क्यों नहीं मालूम क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ता अगर मातृभाषा में पढ़ता होता तो मेरी मां जानती कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा आपको अपने बच्चे के बारे में मालूम नहीं है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ रहा है और जिस दिन मां और बेटे का ये रिश्ता खत्म हो जाता है और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता उसी दिन बच्चे का सत्यानाश शुरू हो जाता दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मां से बड़ा गुरु बच्चे का कोई नहीं होता और अंग्रेजियत का एजुकेशन सिस्टम मां और बच्चे के बीच में दीवार बन के खड़ा होता इसलिए मां अलग होती है बच्चा अलग होता है और एजुकेशन तीसरी ही रास्ते में जाता है ऐसी शिक्षा का करें क्या और वो शिक्षा दे क्या रही है सिवाय बेरोजगारों की एक फौज पैदा करने के इस देश में दिया क्या है इस स्कूली शिक्षा ने कॉलेज की शिक्षा और वो मैकोले सही कहा करता था कि हमको इस देश में एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो शरीर से हिंदुस्तानी हो आत्मा जिसकी अंग्रेज हो वो फौज इस देश में हम देखते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा गालियां देते हैं भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं अपने देश और सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं अमरीका की और यूरोप की और यही वो बच्चे हैं कॉन्वेंट से जो निकल कर आते हैं वही हिंदुस्तान छोड़कर अमरीका भागते हैं और यूरोप भागते हैं भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को वो कहते हैं कि दखिया दूसरी अंधविश्वास और यूरोप की परंपराओं को वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिकता इसी में डेवलपमेंट माने अपनी संस्कृति को गालियां देना और दूसरी संस्कृति के लिए लार कपका के खड़ा होना ये मानसिक गुलामी का सबसे पहला लक्षण होता है वही लक्षण लिए आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं स्कूलों में अंग्रेज जो नहीं कर पाए अपने जमाने में पूरी ताकत लगा के अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में गांव गांव में गली गली में और अब तो ऐसा सत्यानाश हुआ है बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा दो जाके किसी कॉन्वेंट स्कूल में बीस पच्चीस हजार का डोनेशन देना है वो भी दे ये काहे की दौड़ है किधर भाग रहे हैं क्या किधर रहे एक मिनट खड़े होकर समझने की कोशिश करिए कि आप कर क्या रहे और मैं बोले कि आत्मा अगर आपके दिल में नहीं बैठी हुई है तो क्यों ये फैसले करते हैं क्योंकि यूरोप के देशों में और अमेरिका में है और इंग्लैंड के देशों में कॉन्वेंट स्कूल क्यों चलाए गए उनका अपना इतिहास और वो इतिहास ये है कि यूरोप के देशों में बच्चे लावारिस छोड़े जाते थे हजारों साल उनके यहां ये परंपरा रही बच्चे को पाला नहीं जाता था हजारों साल बच्चों को लावारिस छोड़ने की परंपरा रही है यूरोप में और इंग्लैंड में बच्चे पैदा हुए चर्च के सामने छोड़ दिए बच्चे पैदा हुए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया तो जो बच्चे लावारिस होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते उनके लिए वहां कॉन्वेंट स्कूल खोले जाते हैं और कॉन्वेंट का मान ही होता है कि ऐसे बच्चों का स्कूल ऐसा स्थान जहां पर लावारिस बच्चों की पढ़ाई होती हो जिनके मां नहीं जिनके बाप नहीं हमारे यहाँ तो माँ भी है और बाप भी है मम्मी और पप्पा के होते हुए कौन कॉन्वेंट में भेजना है इसका माने क्या मम्मी पप्पा के होते हुए उनको लावारिस बनने के लिए जबरदस्ती भेजो कि जा बेटा तू कॉन्वेंट में पढ़ते कुछ नहीं मिल रहा है उस शिक्षण पद्धति से सिवाय बर्बादी के इस देश के समय की बर्बादी धन की बर्बादी शक्ति की बर्बादी हर चीज की बर्बादी और सबसे ज्यादा दिमाग का तनाव जिसमें आप फंसे हैं रात दिन और उस दिमागी तनाव से अगर कोई सुखद रचनात्मक काम होता तो समझ में आता कुछ भी नहीं हो रहा और एक आखिरी बात है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत इस देश से नहीं गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज रहें या न रहें इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजियत जानी चाहिए और अंग्रेजियत जानी चाहिए तो वो सारी की सारी अंग्रेजों की व्यवस्था की बात करते अंग्रेजियत का माने उनसे कोई पूछे तो वो कहते थे कि अंग्रेजों की पूरी की पूरी व्यवस्था वो इस देश से जानी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य क्या गांधी को जो तो भगा दिया अंग्रेजियत को इसी देश में रखा और गांधी जी जब अंग्रेजियत की व्यवस्था पर टिप्पणी करते थे तो उनकी सबसे कड़ी टिप्पणी थी 1908 और 1909 में उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को वैश्या कहा था और बांझ भी कहा और उन्होंने कहा था कि ये जो वैश्यावृत्ति का तंत्र है यही शब्द थे उनके 1908 और 1909 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का जब गांधी ने अध्ययन कर लिया पूरी तरह से तो दो ही शब्द इस्तेमाल किए थे उसके लिए ये वैश्या है और बांझ है गांधी बहुत अहिंसक व्यक्ति थे शब्दों का इस्तेमाल करने में भी वो हिंसा मानते थे इसलिए उन शब्दों को उन्होंने ठीक से चुनाव करके ही बोला था और बहुत गहराई से बोला था कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वैश्या है और बांझ है और गांधी जी ने ये बात 1908 1909 में कही थी 1947 में जब आजादी आई गांधी मानते नहीं थे कि कोई आजादी आई नोआखली से उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया आप में से शायद कम लोग जानते होंगे कि 14 अगस्त उन्नीस की रात को गांधी दिल्ली में नहीं नोआखली दिल्ली क्यों नहीं आए गांधी जी कहते थे कि ये आजादी नहीं आ रही है ये सत्ता का समझौता हो रहा और वो कहते थे कि मैं इसमें भागीदार बनना नहीं चाहता और उन्होंने बाकायदा नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट किया था कि इस देश की जनता ये बात ध्यान रखे कि 14 अगस्त उन्नीस की रात को जो सत्ता का बंटवारा हो रहा है उसमें मैं भागीदार नहीं हूं इसलिए वो आए नहीं थे सारे बड़े नेता दिग्गज दिल्ली में मौजूद थे लेकिन गांधी नोआखली में और उस समय वहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि बापू आपने तो कहा था 1908 और 1909 में कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वैश्या है और बांझ है तो गांधी ने कहा था उसमें एक प्रतिशत भी बदलाव नहीं करता मैं आज भी मानता हूं कि ये वैश्या है और बांझ है तो पत्रकार ने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा ये कुछ दिन के बाद तुमको पता चल जाए और वो बात आज पचास साल के बाद साबित हो गई वैश्या कौन होती है वैश्या के दरवाजे पर राजा जाए या भिखारी सबकी एक जैसी सेवा करती है वैश्या के दरवाजे पर विद्वान जाए या बड़े से बड़ा अपराधी सबकी एक जैसी सेवा करती है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी आज यही हो रहा बड़े से बड़ा अपराधी भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठा जिसने तीस मर्डर किए हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी उसी पार्लियामेंट में बैठा है दोनों एक बराबर हैं ये वैश्या के ही दरवाजे पर होता है जो पार्लियामेंट में गांधी जी ने बांझ इसलिए कहा था गांधी जी ने कहा था कि पूरी ताकत तुम लगा देना तो भी इस सिस्टम में से कुछ निकलने वाला नहीं है आज पचास साल के बाद ये सिद्ध हो गया है कि उसमें से कभी कुछ नहीं निकलने इसलिए गांधी मना करते थे गांधी ने तो एक और करारा स्टेटमेंट दिया था आजादी के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो तो एक पत्रकार ने पूछा बापू क्यों कह रहे हो ऐसा तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस देश को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेजों ने लूटा अगर इसको खत्म नहीं करोगे तो लोगों ने कांग्रेस को तो खत्म नहीं किया लेकिन गांधी को खत्म कर दिया क्योंकि गांधी उनके रास्ते में रोड़ा बनने लगे गांधी को तो रास्ते से हटाए और गांधी की कही हुई बात आज सत्य सिद्ध हुई है कि इन्होंने हिंदुस्तान को इतना लूट लिया है जितना कभी अंग्रेजों ने भी शायद इस देश को नहीं लूटा और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में से कभी कुछ नहीं निकलेगा आपने कभी सोचा कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस देश में बनाई किस अंग्रेजों ने बनाई उन्नीस उन्नीस सौ पच्चीस सौ छब्बीस धोखा हो रहा और वो कहते थे कि मैं इसमें भागीदार बनना नहीं चाहता और उन्होंने बाकायदा नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट किया था कि इस देश की जनता ये बात ध्यान रखे कि 14 अगस्त उन्नीस की रात को जो सत्ता का बंटवारा हो रहा है उसमें मैं भागीदार नहीं हूं इसलिए वो आए नहीं चुके नेता दिग्गज दिल्ली में मौजूद थे लेकिन गांधी नोआखली में और उस समय वहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि बापू आपने तो कहा था 1908 और 1909 में कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वैश्या है और बांझ है तो गांधी ने कहा था उसमें एक प्रतिशत भी बदलाव नहीं करता मैं आज भी मानता हूं कि ये वैश्या है और बांझ है तो पत्रकार ने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा यह कुछ दिन के बाद तुमको पता चल जाए और वो बात आज पचास साल के बाद साबित हो गई वैश्या कौन होती है वैश्या के दरवाजे पर राजा जाए या भिखारी सबकी एक जैसी सेवा करते हैं वैश्या के दरवाजे पर विद्वान जाए या बड़े से बड़ा अपराधी सबकी एक जैसी सेवा करती है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी आज यही हो रहा बड़े से बड़ा अपराधी भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठा जिसने तीस मर्डर किए हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी उसी पार्लियामेंट में बैठा है दोनों एक बराबर है ये वैश्या के ही दरवाजे पर होता है जो पार्लियामेंट में और गांधी जी ने बांझ इसलिए कहा था गांधी जी ने कहा था कि पूरी ताकत तुम लगा देना तो भी इस सिस्टम में से कुछ निकलने वाला नहीं है आज पचास साल के बाद ये सिद्ध हो गया है कि उसमें से कभी कुछ नहीं निकलने इसलिए गांधी मना करते थे गांधी ने तो एक और करारा स्टेटमेंट दिया था आजादी के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो तो एक पत्रकार ने पूछा बापू क्यों कह रहे हो ऐसा तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस देश को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेजों ने लूटा अगर इसको खत्म नहीं करोगे तो लोगों ने कांग्रेस को तो खत्म नहीं किया लेकिन गांधी को खत्म कर दिया क्योंकि गांधी उनके रास्ते में रोड़ा बनने लगे गांधी को तो रास्ते से हटाया और गांधी की कही हुई बात आज सत्य सिद्ध हुई है कि इन्होंने हिंदुस्तान को इतना लूट लिया है जितना कभी अंग्रेजों ने भी शायद इस देश को नहीं लूटा और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में से कभी कुछ नहीं निकलेगा आपने कभी सोचा कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस देश में बनाई किस अंग्रेजों ने बनाई 1925 1926 में ये पार्लियामेंट बना उसके पहले इस देश में वॉयसराय की काउंसिल होती थी उस काउंसिल से पूरा देश चलता था 1925-26 में पार्लियामेंट की इमारत बनी और सेंट्रल लेजिस्लेचर सिस्टम इस देश में शुरू हुआ लेकिन ये जो पार्लियामेंट की इमारत है कभी आपने इस पर गौर किया है ये गोल क्यों है हिंदुस्तान का पार्लियामेंट गोल क्यों हमारे देश में जो भारतीय वास्तुशास्त्र है ना उसके नियम के अनुसार गोल इमारतें सबसे अशुभ मानी जाती सबसे खराब मानी जाती भारतीय वास्तुशास्त्र में कभी भी कोई इमारत गोल नहीं बनाई जाती मंदिर भी कभी गोल नहीं बनाए जाते आधे गोल होते हैं फिर पिरामिड स्ट्रक्चर होता है लेकिन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत ही गोल है जबकि इस वास्तुशास्त्र के अनुसार वो सबसे अशुभ है सबसे खराब है क्यों गोल जो होता है वो शून्य होता है और शून्य में से हमेशा शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता तो पचास साल से इसमें से सिवाय शून्य के और कुछ नहीं निकला और पचास साल से जिस इमारत में से सिर्फ शून्य निकल रहा है उस इमारत को चलाने के लिए खर्चा कौन दे रहा है आप दे रहे हैं हम दे रहे हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं पार्लियामेंट अगर एक मिनट के लिए चलती है तो सात हजार रुपया खर्च होता है उसमें एक मिनट और एक साल में कम से कम आठ महीने छह महीने आठ महीने पार्लियामेंट चलती है और एक दिन में कम से कम छह घंटे आठ घंटे पार्लियामेंट चलती है उसका हिसाब अगर आप जोड़े एक मिनट के सात हजार रूपये के हिसाब से तो सैकड़ों करोड़ रुपए का हिसाब बैठा पार्लियामेंट के चलने का और वो सैकड़ों करोड़ रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो किसकी जेब के आपकी जेब के हैं मेरी जेब और वहां जो सैकड़ों करोड़ों रुपए आप खर्च कर देते हैं उसका नजारा आपने देखा है कभी जब आपस में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के एमपी लड़ते हैं तो आपने लड़ते हुए नजारा देखा है कभी माने एक दूसरे की धोती उतारने में कोई कसर कम रह जाती है क्या और कभी कभी तो ऐसा नजारा आपने शायद देखा नहीं हो मैंने देखा मेरे उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक बार ऐसा अद्भुत हुआ कि ये जो माइक होता है माइक के डंडे निकाल निकाल कर एक दूसरे के सिर तोड़ दिए लोग और मेज पर जो पेपर वेट रखा रहता है उस पेपर वेट को मारकर सभापति का सिर तोड़ दिया था मेरे उत्तर प्रदेश की असेंबली और बिहार की असेंबली में तो क्या क्या नहीं होता है आप उसकी कल्पना नहीं करें और इनको चलाने का खर्च कौन देता है आप देते हम देते सात हजार रूपये मिनट का खर्चा हम करते हैं और मैं नहीं कहता हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लोकसभा के जो स्पीकर संगमा था उन्होंने अभी दो महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया क्या स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नब्बे से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं लेकिन वो पार्लियामेंट में और हिंदुस्तान की तमाम असेंबलीज में विधानसभाओं में सात हजार से ज्यादा ऐसे एमएलए हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं माने जिन्होंने क्राइम किया जिन्होंने अपराध किए और ऐसे अपराध किए हैं हत्या करने वाले अपराध कोई छोटे मोटे अपराध नहीं तो हत्या करने वाले अपराध करने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं जिनको तिहाड़ जेल में अंदर होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हुए और दुर्भाग्य से आप ऐसी पार्लियामेंट को झेल रहे हैं और चला रहे हैं काहे की डेमोक्रेसी है और कौन सी डेमोक्रेसी है और इस देश में अब तो ये फैशन और शगल बन गया है जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना ही बड़ा टिकट का दावेगा और कोई राजनीतिक पार्टी चुनौती देता हूं मैं कि उनको ये कह नहीं सकती कि उनकी पार्टी में अपराधी नहीं हर पार्टी सबसे पहले अपराधियों को टिकट बांट रही है माने सारी की सारी राजनीति ऐसी सड़ गई है कि सिवाय अपराधी के वो काम नहीं चला सकते तो ऐसे नेताओं को नेता कहें जो अपराधियों के दम पर बंदूक चलाते हैं और इनको आप नेता कहते हो इस देश का एक एक पार्लियामेंट के एमपी का एक एक महीने का खर्चा चालीस हजार रूपये का है और चालीस हजार रूपये के खर्चा एक एक एमपी इस देश में करता है महीने भर में उस पर भी पेट नहीं भरता तो अब एमपी कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो हमारा टीए बढ़ा दो हमारा डीए बढ़ा और कितना बढ़ाने की बात चल रही है सत्तर हजार रूपये महीना करवा रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूं पूरी चुनौती से ये कह रहा हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के एमपीज की तनख्वाह बढ़ाने वाला बिल आएगा मुश्किल से पंद्रह मिनट लगेंगे और वो पारित हो जाएगा सब पारितों के एमपी एक दिशा में खड़े होंगे और सब उसको पारित करना कोई एक एमपी ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि जिस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो जिस देश में चालीस करोड़ लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता हो पीने के लिए पानी नहीं मिलता हो उस देश के प्रतिनिधि सत्तर हजार रूपये महीने खर्च करें इससे ज्यादा शर्मनाक और दूसरी कौन सी बात हो सकती है लेकिन ये आपकी आंखों के सामने है और चल रहा जब जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ाने का मसला आता है सारी पार्टियां एकजुट होकर उसको पारित करा लेती हैं जिनको आप नेता कहते हो उनको मैं वेतन भोगी क्लर्क मानता हूं क्योंकि जो वेतन भोगी क्लर्क होता है वो हल्ला करता है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ मेरा डीए बढ़ाओ मेरा डीए बढ़ाओ मेरा एचआरए बढ़ाओ ये अपने आप को नेता कहलाने वाले लोग भी वैसे ही करते हैं जैसे वेतन भोगी क्लर्क और इनको आप नेता कहते हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते चार चार ब्लैकेट कमांडोज लेके चलते और हिंदुस्तान के सिर्फ दस ऐसे एमपीज हैं पार्लियामेंट में जिनके एक साल की सुरक्षा का खर्चा 300 करोड़ रुपए है सिर्फ दस एमपी ये 300 करोड़ का खर्चा कौन दे रहा है आपकी जेब से जाता है मेरी जेब से जाता है क्या कहते हैं साहब उनकी जान जाने का डर है माने उनको मरने का डर है और ऐसे देश में मरने से डरते हैं जहां बार बार जन्म की कल्पनाएं हैं इस हिंदुस्तान में तो बार बार जन्म मिलता है पुनर्जन्म होता है काहे को डरते हो इस देश में मरने से कोई बहुत कीमती जान हो तो समझ में आता है उसको बचाया जाए जो कीमती जाने थी इस देश में वो कभी ब्लैक कैट कमांडोज लेके नहीं घूमती महात्मा गांधी के पास कौन से ब्लैक कैट कमांडोज उससे बड़ा नेता इस देश में कौन हुआ उससे बड़ा राजनेता कौन हुआ है दुनिया में जिस आदमी के मरने पर दुनिया के पचास देशों ने अपने झंडे झुकाए हो उससे बड़ा नेता दुनिया में कौन हुआ है उसने तो कभी ब्लैक कैट कमांडोज की बात नहीं की सरदार भगत सिंह के पास तो कभी ब्लैकहेड्स कमांडोज नहीं थे चंद्रशेखर आजाद के पास तो कभी ब्लैकहेड्स कमांडोज नहीं थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो कभी ब्लैकहेड्स कमांडो रखने की जरूरत नहीं थी अपनी सुरक्षा में तो ये इतने बड़े बड़े लोग जो सीधे ब्रिटेन की साम्राज्य शक्तियों से लड़ रहे थे जिनका दुश्मन उनके सामने खड़ा होता था और जिनके एक एक पल डर था मौत का जिनको एक एक पल डर था कि कब अंग्रेजों की गोली आएगी और कब पार चली जाएगी पीने से उन्होंने कभी ब्लैक टेस्ट कमांडोज नहीं रखे और ये कल के दुम छल्ले लोग जिनको ठीक से साइकिल चलाना भी नहीं आता था दो महीने पहले अब चार चार ब्लैक टेस्ट कमांडोज लेके घूमते और नेता तो इस देश में एक ही था सुभाष चंद्र बोस ये तो सब वेतन भोगी क्लर्क हैं दुर्भाग्य से आपने इन्हीं को नेता कहना शुरू कर दिया इनमें से नेता कोई है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की क्या रक्षा करेगा जरा इस मोटी सी बात को समझिए कि जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जो रक्षा मंत्री जो वित्त मंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की रक्षा क्या करेगा ये तो सब नाटक है आपको बेवकूफ बनाने का आपको बर्बाद करने का आपकी जेब से निकाले हुए पैसे को बर्बाद करने और इसलिए मैं कहता हूं कि ये parliamentary democratic system Gandhi ji के कहे अनुसार वैसा ही है जो गांधी जी ने कह दिया पचास साल से इसमें से कुछ नहीं निकला पचास साल पहले जो देश की समस्याएं थी वो पचास साल बाद भी पचास साल पहले पीने के पानी की समस्या थी आजादी के पचास साल के बाद दो लाख गांव में पीने का पानी नहीं पचास साल पहले इस देश में दो ढाई करोड़ लोग बेरोजगार थे पचास साल के बाद सोलह करोड़ हो गए पचास साल पहले इस देश में चार पांच करोड़ लोग गरीब थे पचास साल के बाद चालीस करोड़ हो गए एक भी समस्या का समाधान और ये पार्लियामेंट आज भी उतनी ही गुलाम है अंग्रेजों की जितनी कभी उस जमाने में होती थी कभी आप लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान की सरकार का बजट 28 फरवरी की शाम को 5 बजे क्यों आता पार्लियामेंट तो सवेरे 11 बजे चालू हो जाता बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है कभी आपने इस पर दिमाग लगाया क्यों होता है इसलिए होता है कि इंग्लैंड में नया financial year new financial year एक मार्च से शुरू होता तो इंग्लैंड में 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता तो अब तो इंग्लैंड नहीं है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नया फाइनेंशियल ईयर दिवाली से शुरू होता और हिंदुस्तानी पद्धति और भारतीय पद्धति के अनुसार हिंदुस्तान का बजट या तो दिवाली के एक दिन पहले आना चाहिए या दिवाली वाले दिन आना चाहिए क्योंकि भारतीय पद्धति में सारे देश में नया फाइनेंशियल ईयर दिवाली से शुरू होता है अंग्रेजों के यहां एक मार्च से शुरू होता है अंग्रेज तो चले गए अंग्रेजों के जाने के बाद पचास साल बाद भी वही परंपरा चल रही है और ये शाम को पांच बजे बजट पेश करने की क्या तुम है अंग्रेजों के जमाने में इस देश में शाम को पांच बजे बजट इसलिए पेश किया जाता था क्योंकि यहां जब शाम के पांच बजते हैं उस समय लंदन के पार्लियामेंट में सवेरे के साढ़े दस और ग्यारह बजते हैं यहां जब बजट पेश होता था तो लंदन उसकी कमेंट्री जाती थी तो वहां के एमपी उसको बैठ के सुनते थे तो अब तो वो नहीं है चक्कर अब क्यों शाम को पांच बजे बजट पेश किया जाता है लेकिन गुलामी इतनी जबरदस्त है इन नेताओं के दिमाग में भी कि किसी को यह प्रश्न सूझता नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या अंग्रेजों के पार्लियामेंट में शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है हिंदुस्तान में भी वही है शनिवार और इतवार की छुट्टी और यहां कहते हैं संडे संडे संडे का माने क्या होता यूरोप के देशों में कभी कभी कोई दिन सूरज निकलता है तो जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन संडे हिंदुस्तान में तो एवरी डे संडे यहां तो रोज सूरज निकलता और आज निकला है तो कल भी निकलेगा कल निकला है तो परसों भी निकलेगा परसों निकला है तो नरसों भी निकलेगा चार महीने बाद भी निकलेगा साल भर बाद भी निकलेगा यहां के संडे मंडे का चक्कर क्या है अंग्रेजों के जमाने में कोई कोई सुबह ऐसी होती है जो बहुत अच्छी मानी जाती है जिस दिन सूरज निकल आए टेम्परेचर कम हो धूप खिली हुई हो मौसम साफ हो तो कहते हैं गुड मॉर्निंग माने आज की सुबह बहुत अच्छी है तो आपको कोई विश करेगा गुड मॉर्निंग आप किसी को विश करेंगे गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान में तो every morning is good morning यहां का तो गुड मॉर्निंग की परंपरा है लेकिन है करे क्या वो दिमाग अंग्रेजियत वाला है और उसी अंग्रेजियत वाले दिमाग से पार्लियामेंट चलती अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में एक कानून बनाया वो कानून अंग्रेज हिंदुस्तान में लागू करके गए वो कानून क्या है कि अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट है उसमें कानून जब बनते हैं तो कानून की ड्राफ्टिंग करने का काम सेक्रेटरी करते हैं एमपीज नहीं करते एमएलए नहीं करते ये अंग्रेजों की परंपरा है वही परंपरा जब वो हिंदुस्तान में रहते थे जब तक की अब आजादी से 50 साल आ गए हैं तो भी हिंदुस्तान में यही चलता है पार्लियामेंट में जितने एमपी जाते हैं या असेंबली में जो एमएलए जाते हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग नहीं करते कानून की ड्राफ्टिंग सेक्रेटरीज करते हैं एमपीज और एमएलए सिर्फ उस पर डिबेट करते हैं और कुछ नहीं करते अंग्रेजों ने बनाई थी वो परंपरा उनके अपने हिसाब से उन्होंने बनाई हम क्यों उसको चला रहे हैं कौन से तर्क है उसको चलाने के पीछे और कोई भी राजनीतिक पार्टी इन मूल प्रश्नों को नहीं उठाती क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है सत्ता की दौड़ से कुर्सी की दौड़ से किसी को भी बाहर आने की फुर्सत नहीं है और इसलिए ये सवाल वैसे ही गड्ढे में डाले जाते हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में पढ़ते रहे इसलिए पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका गुलामी वाला है पूरा का पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर जो न्याय का तंत्र है वो गुलामी वाला है पूरा का पूरा शिक्षा का तंत्र गुलामी वाला है और पूरा का पूरा आर्थिक तंत्र आपका गुलामी वाला है और जो कुछ गुलामी थी अंग्रेजों के जमाने में उससे कई गुना ज्यादा गुलामी अब जा रही है अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकता था आज क्या हो रहा परदेशी कंपनियों का माल गांव गांव गली गली में बिकता ईस्ट इंडिया कंपनी का माल लोग क्यों खरीदते थे क्योंकि अंग्रेजों का माल क्वालिटी वाला है हिंदुस्तानी माल घटिया है आज भी वही तर्क है विदेशी माल क्यों खरीदते हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी है और स्वदेशी माल घटिया होता है पलट के जब मैं किसी से पूछ लेता हूं कि भाई क्या क्वालिटी है परदेशी माल में तो किसी को नहीं मालूम कि क्या क्वालिटी बस इतना ही कहते हैं क्वालिटी और कितना परदेशी कंपनियों का माल हम सब आज खरीदते हैं अंग्रेजों के जमाने में भी उतना नहीं खरीदा जाता था जितना आज खरीदा जाता है आजादी के पचास साल के सवेरे ही सवेरे सो के उठते हैं परदेशी कंपनियों की चाय पीते हैं सबसे पहले ब्रुक लिप्टन रेड लेवल ताजमहल टी सिटी आईटीसी गॉड प्लेस इतनी सारी चाय कॉफी पी के फिर उसके बाद दांत साफ करते हैं कॉलगेट क्लोजअप सिबाका ऑर्गन ग्लीम ग्लो ढेर सारे टूथपेस्ट और उसके साथ टूथब्रश फिर उसके बाद दाढ़ी बनाने जाते हैं तो पामो लिखता जवाब नहीं कपिल देव कहता डेरेस्मिक का प्लेट विल्किन कंसॉर्ट का बिल्टेक का तमाम तरह का आफ्टर सेव रोशन सब प्रदर्शन उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं तो साबुन Lux Liril Rexona Pear Sunlight Camay Palmolive Johnson and Johnson क्या क्या नहीं दिखता इसमें उसके बाद कपड़ा धोने के लिए Surf Rin Ariel ultra micro system सब परदेशी कंपनी उसके बाद पहनने के कपड़े रेंगलर का जीन एडिडास का शर्ट बटरफ्लाई का बाटा का प्यूमा का लोग हमारे देश में कुछ साल पहले एक परदेशी कंपनी आई उसने क्या फैशन चलाया एकदम टाइट जीन और एकदम टाइट शर्ट और इतनी चुस्त होती थी कि चढ़ती नहीं तो लड़कों को मैं देखता था कि लेट लेट के चढ़ाते अब कुछ दिन के बाद एक दूसरी कंपनी आई उसने फैशन बदल दिया एकदम ढीली पैंट और एकदम ढीली और इतनी ढीली कि एक में दो दो आ जाए अब आप किसी से पूछो कि भैया क्या पहने हो कहेगा बैगी बैगी का माने क्या होता हमको नहीं मालूम बस पहने हुए अंग्रेजी में एक शब्द होता है उसको कहते हैं बैगर बैगर का माने होता भिखारी और उसी अंग्रेजी में दूसरा शब्द होता है बैगी बैगी का माने होता है the man who appears to be a beggar एक आदमी जो दिखने में भिखारी जैसा लगता हो उसको कहते हैं बैगी और हमारे नौजवान तो चढ़ाए घूमते कहते हम तो बड़े स्मार्ट दिमाग लगा के सोचते नहीं कि क्या पहने हुए हैं और क्या कर रहे हैं विदेशी कंपनियों के कपड़े पहन पहन के फिर जूते ऊपर एडिडास के बटरफ्लाई के बाटा के प्यूमा के लोटो के मोजे भी उनके स्कूल कॉलेज में जाते हैं काम करने के लिए पेन पेंसिल भी परदेशी कंपनी रेनॉल्ड का रोटोमैन का मैं पूछता हूं भैया क्यों खरीदते हो ये तो कहते राजीव भाई लिखते लिखते अगर लिखते ही लिखते सब हो जाए तो हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों का तो घंटाधार होने वाला है आप बच्चों को वहां लिखते ही लिखते सब करने के लिए भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं और वो पेन पेंसिल खरीद के इस्तेमाल करके घर वापस आते हैं ऑफिस से कॉलेज से चाय कॉफी पीते हैं नाश्ता करते हैं ब्रिटेनिया का बिस्किट कैडबरीज का नेस्ले का मारी का फिर बाजार में जाते हैं तो प्यास लगती है Pepsi cola Coca cola Thums Up Limca Citra mango Frooti क्या क्या नहीं पीते बच्चे घर में जिद करते हैं तो टॉफी चॉकलेट खाते हैं कैडबरीज की नेस्ले की मारी की क्या क्या नहीं बिकता इस देश में और रात जब हो जाती है तब कोई बच्चा अपने घर में अपनी अम्मा से कहता है मम्मी मम्मी भूख लगी मम्मी कहती है बस दो मिनट <laughs> तो दो मिनट में सड़े ना देगी मैगी बना के अभी कोई बच्चा अपनी अम्मा से भाखरी नहीं मांगता दूध नहीं मांगता सब्जी नहीं मांगता दाल नहीं मांगता सड़े मैदे की मैगी मांगता और अम्मा भी बना के देती है और पेट नहीं भरता तो अंकल्स का चिप्स रफल्स का हॉस्टेस का टॉप रेमन का क्या क्या नहीं मिलता है और मेरे जैसे लोग को तो बहुत क्रोध आता अभी तो हिंदुस्तान में परदेशी कंपनियों का नमक बिक रहा है अन्नपूर्णा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया दांडी और एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके गांधी ने कसम खाई थी कि आज के बाद इस देश में परदेशी कंपनी का नमक नहीं बिकेगा और कोई नहीं खाएगा लेकिन आज उसी देश में गांधी के देश में हम परदेशी कंपनी का नमक खरीद के खा रहे हैं अन्नपूर्णा कौन से गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं नाथूराम गौडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी हम सारे लोग तो गांधी की आत्मा की हत्या कर रहे हैं जब हमारे घरों में अन्नपूर्णा नमक आ इतना ये देश गुलामी में गिर गया घर घर में विदेशी सामान घर घर में इम्पोर्टेड माल और लोग बराबर यही तर्क देते हैं राजीव भाई उसमें क्वालिटी है और मैं लोगों से पलट के पूछता हूं अच्छा बताइए ब्रुकबॉन्ड की चाय लिप्टन की चाय ताजमहल की चाय में क्या क्वालिटी है तो आपको तो शायद मालूम नहीं चाय में कोई क्वालिटी नहीं है चाय में जहर है और उस जहर का नाम है टैनिन और कॉफी में उससे भी भयंकर जहर है उसका नाम है कैफीन ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर कैंसर कर देते एक सिगरेट पीने से जो जहर आपके शरीर में जाता है उतना ही जहर तीन प्याला चाय पीने से जाता है एक प्याला कॉफी पीने से जाता है 25 साल पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था कॉफी पीता नहीं था इसलिए कोई जानता भी नहीं था कि कैंसर नाम की बीमारी क्या होती है और आज पिछले 20-25 साल से जिसको देखो उसको कैंसर जिसको सुनो उसको कैंसर ये कहां से आया जहर पी रहे हैं तो जहर जैसा शरीर बने और सवेरे ही सवेरे जहर पी लेते हैं मुझे तो बड़ा दुख होता है और ऐसी आदत पड़ गई है जैसे शराबी की आदत होती है शराबी आदमी को रोज शराब चाहिए और अगर एक दिन शराब नहीं मिले पीने के लिए तो उसके सिर में दर्द होता शरीर में दर्द होता शरीर ढीला ढीला पड़ जाता ठीक वही हालत होती है चाय कॉफी पीने वाले की अगर चाय कॉफी पीने वाले को एक दिन चाय नहीं मिली एक दिन कॉफी नहीं मिली तो उसका भी सिर दर्द करता है शरीर काम नहीं करता क्यों ठीक वैसा ही जहर है चाय कॉफी जैसे शराब पूरे शरीर को नशे का शिकार बना देता है वही चाय और कॉफी करता है और ये आप जान लीजिए कि चाय और कॉफी हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं है अंग्रेज लाए थे इस देश और अंग्रेजों के जमाने में चाय कॉफी बिकती नहीं थी तो अंग्रेजी कंपनियां मुफ्त में चाय बांटती थी और मुफ्त में चाय पिला पिला के इस देश को बर्बाद कर दिया हमने और आज हम पैसा देकर खरीद कर चाय पीते हैं जहर पीने के लिए पैसा देते हैं और मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि कई घरों में छोटे छोटे बच्चों के दूध में चाय मिला के पिलाते हैं बचपन से ही जहर मिला रहे हैं और बड़े इंटेलिजेंट मम्मी पप्पा है कि खुद तो बर्बाद हो ही रहा है बच्चों को भी बर्बाद कर ऐसा इस देश में चक्कर फंस और वो चाय कॉफी जैसा जहर पी पी के अपना शरीर तो बर्बाद कर ही रहे हिंदुस्तान भी बर्बाद हो रहा है हिंदुस्तान क्या बर्बाद हो रहा है ये परदेशी कंपनियों की चाय कॉफी जब बिकती है तो पांच हजार छह सौ करोड़ रुपया वो यहां से ले जाते हैं जहर बेचते हैं किसी काम की नहीं जो चीज वो बेची जाती है और पांच हजार छह सौ करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर चला तब आप पूछेंगे कि क्या करें जितनी जल्दी हो चाय कॉफी पीना बंद कर दीजिए और बच्चों को तो बिल्कुल बंद करा दीजिए आप पूछेंगे क्या पिए हिंदुस्तान में पीने के लिए बहुत कुछ है दही की छाछ दही की लस्सी नींबू का शरबत नारियल का पानी संतरे का रस मौसम्बी का रस गन्ने का रस केरी का रस क्या नहीं है पीने पिलाने के लिए इस देश में हजारों तरह के शरबत बनते हैं दक्षिण से उत्तर भारत तक चले जाए हजारों किस्म के प्रिपरेशन है इस देश में कहीं भी चले जाए लेकिन वो सब भूलते जा रहे हैं चाय पीते चले जा रहे हैं और कई लोग कहते हैं कि राजीव भाई सब लोग दूध नहीं पी सकते सब लोग छाछ नहीं पी सकते तो उनके लिए मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सकते तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए उससे बढ़िया कोई दूसरी चीज और आपको मैं बताऊं कि यह गर्म पानी बहुत बड़ी चीज है यूरोप में और अमेरिका में सामान्यतः हर व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का मरीज है कब्जियत का शिकार है क्यों शिकार है वहां कब्जियत के लोग क्योंकि हमेशा ठंडा पानी पीते और फ्रिज के पानी में भी बर्फ डाल डाल के पीते इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है कॉन्स्टिपेशन करना हो तो फ्रिज का पानी पीजिए ठंडा पानी पीजिए जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हो जाए पेट भी बर्बाद हो जाए और अगर कॉन्स्टिपेशन से आपको मुक्ति पानी है तो गर्म पानी पीना शुरू कर दिया और मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो मेहमान आता है वो आपका भगवान है कि दुश्मन खुद मरेंगे चाय कॉफी पी के मेहमान को भी मार रहे हैं चाय कॉफी पिला पिला इसलिए अगर मेहमान की अतिथि देवो भवे वाली परंपरा का स्वागत करना है तो खुद गर्म पानी पीजिए मेहमान को भी एक गिलास गर्म पानी पिलाइए पैसे का खर्चा नहीं होने वाला गर्म पानी बनाने में एक पैसे का खर्चा नहीं होने वाला और जो लोग जैन धर्म का पालन करते हैं उनके यहां तो गर्म पानी धार्मिक रूप से सबसे जरूरी माना जाता है ये धार्मिक रूप से जो जरूरी माना जाता है वो बहुत वैज्ञानिक चीज है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं इसलिए आप मेरा एक निवेदन स्वीकार करें कि चाय कॉफी पीना बंद करें हिंदुस्तान का पांच हजार छह सौ करोड़ बचेगा और गर्म पानी पिए दूसरे को पिलाएं या कोई दूसरी चीज पिए दूसरे को पिलाएं हिंदुस्तान का कुछ भला हो सकता है इस आर्थिक गुलामी में जो हम फंस गए हैं परदेशी कंपनियों की इसमें से हम बाहर आ और दूसरा हम लोग ये जो टूथपेस्ट करते हैं कॉलगेट क्लोजअप सिवाका फॉरहन क्या समझ के करते हैं ये समझ के करते हैं कि कॉलगेट सांस की बदबू दूर करता है दांतों की सड़न दूर करता है मैं कभी कभी कहता हूं जब कॉलगेट नहीं था तो सबके दांत सड़ जाते हो और सबकी सांस में बदबू आती हो और ये बात हम हमारे बुजुर्गों से पूछें उन बुजुर्गों के जमाने में तो कॉलगेट होता नहीं तो उनसे पूछिए कि आपके दांत तो सड़ गए होंगे और आपके सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कोई आपके पास नहीं बैठता हो आपको पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों के दांत हमसे ज्यादा अच्छे क्यों क्योंकि लीबड़ा का दातुन करते हैं बबूल का दातुन करते हैं और उंगली से करने वाला मंचन करते हैं दुनिया में सबसे अच्छी चीज है लिमड़ा का दातुन बेस्ट क्वालिटी और सबसे रद्दी चीज है कॉलगेट का टूथपेस्ट जो सबसे रद्दी है कॉलगेट टूथपेस्ट वो सबसे ज्यादा बिकता है घर घर में बिकता है पता है क्यों है कॉलगेट का टूथपेस्ट क्लोजअप सिवा का फॉरहन ये सब बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे और ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूड़ा आता कहां से आपके बाजू में कतल कारखाना है ना देवनार का यहां दस हजार पशु रोज कटते हैं और यहां जो दस हजार पशु रोज कटते हैं इनका मांस तो चला जाता है बिकने के लिए इनकी हड्डियों का क्या होता उनकी हड्डियों को ये खरीदते हैं टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी उनको सुखाते हैं सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं उससे टूथपेस्ट बनता और सवेरे ही सवेरे उठ के अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं क्या जानवरों की हड्डियों का चूड़ा और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है दांतों की सड़न दूर हो रही है हंड्रेड परसेंट यूडियोसिटी एक भी क्वालिटी और ये जितने टूथपेस्ट है उनमें एक जहर और फ्लोराइड नाम का जहर ये फ्लोराइड नाम का जहर फ्लोरोसिस बीमारी करता और तीसरा एक और जहर सिंथेटिक डिटर्जेंट ये सिंथेटिक डिटर्जेंट कोई चीज है जो सर्फ में और रिंग में मिलाई जाती है झाग पैदा करने के लिए वही टूथपेस्ट में डालते और ये तीनों जहर एक साथ आप इस्तेमाल करते हैं जब आप पेस्ट करते हैं समझते तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट है लेकिन है आप दुनिया के नंबर एक के ईडियट्स <laughs> और इस देश में कॉलगेट पता है क्यों दिखता आपके घर में एक टेलीविजन रखा उसको मैं ईडियट बॉक्स वो टेलीविजन क्या दिखाता दो पति पत्नी साथ साथ चलते थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर ले कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं सांस में बदबू तो आएगी फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता है उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी जानते हैं इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे तो आप बताइए इससे बड़ी ईडियोसिटी e कोई दूसरी हो सकती है भारतीय संस्कृति कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम परस्पर सद्भाव परस्पर सम्मान पर टिका होता ईडियट बॉक्स कह रहा है नहीं कॉलगेट पेस्ट पर टिका होगा और इस ईडियो सिटी के चक्कर में आके आप कॉलगेट खरीदते ना कि उसकी क्वालिटी के और आपको एक जानकारी और दे दू कॉलगेट टूथपेस्ट पर आईएसआई मार्क नहीं है क्लोजअप पर भी नहीं है सिवाका पर भी नहीं है फॉरन पर भी नहीं आईएसआई मार्क किसको मिलता है जिस पेस्ट में जिस वस्तु में क्वालिटी होती है उन्हीं को आईएसआई मार्क मिलता है कॉलगेट क्लोजअप सबसे रद्दी टूथपेस्ट है इसलिए इनको आईएसआई मार्क नहीं मिलता लेकिन दुर्भाग्य से वो सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि आपके दिमाग को उल्टा कर दिया है और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है टूथब्रश जो प्लास्टिक का होता है आप उसको खरीद कर ले आते हैं अपना मुंह रगड़ने के लिए आपको मालूम नहीं है प्लास्टिक दुनिया की सबसे रद्दी चीज है दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लास्टिक की रखी हुई कोई चीज खाने लायक नहीं होती मुंह में डालने की बात तो बहुत ही दूर जहर है लेकिन हम क्या करते हैं वही प्लास्टिक के ब्रश को रोज रगड़ते हैं अपने मुंह से और आप शायद जानते होंगे कि कोई भी नए से नया प्लास्टिक का ब्रश ले आइए पंद्रह बीस दिन के बाद उसमें सफेद सफेद पीला पीला जम जाता है नीचे और वो जो सफेद सफेद पीला पीला जम जाता है उसमें सैकड़ों तरह के जीवाणु वायरसेस बैक्टीरिया पनपते हैं और उसको हम पता नहीं कैसे मुंह से रगड़ते इतना अनहाइजीनिक है लेकिन पता नहीं कैसे मुंह में चला जाता है मेरे तो समझ में नहीं आता और इसके विपरीत आप पूछें तब क्या करें दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का टूथब्रश है लिमड़ा का दातुन नीम का दातुन बेस्ट क्वालिटी का टूथब्रश है बबूल का दातुन लिमड़ा का दातुन खरीदिए बबूल का दातुन खरीदिए आपको शायद मालूम नहीं है अमेरिका में और जर्मनी में कैंसर की सबसे अच्छी दवाएं नीम के पेड़ से बनती हैं लेकिन इन दोनों देशों में नीम नहीं होता तो नीम जाता कहां से हिंदुस्तान से जाता और अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट करा लिया है ताकि आगे आने वाले समय में उस नीम का दोहन कर सके और उससे बिलियन ऑफ डॉलर कमा सके हमको मालूम नहीं हर घर के सामने नीम का आप कहेंगे आएगा कहां से लिबड़ा का दातुन बबूल का दातुन मैं बंबई के हर स्टेशन पर देखता हूं नीम का दातुन बिकता है बबूल का दातुन बिकता है और जो दातुन बेचने वाले लोग हैं वो सबसे गरीब लोग हैं आपके समाज में अगर आप पेस्ट खरीदना बंद करके उनका दातुन खरीदना शुरू करें तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा और उस गरीब आदमी को अगर पैसा मिलेगा तो उसकी रोजी रोटी चलेगी और गरीब और भूखे आदमी को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का तो आप सिर्फ नातून ही नहीं खरीदेंगे बल्कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म का पालन करेंगे और हिंदुस्तान का हर साल 480 करोड़ रुपया बचेगा ये कॉलगेट कंपनी अमरीका की हॉर्हन स्विट्जरलैंड की सिवागा भी स्विस कंपनी और पैप्सोडेंट डच कंपनी ये चार पांच कंपनियां एक साल में चार सौ अस्सी करोड़ कमा के ले जाती कॉलगेट कंपनी आई थी पचास हजार रूपये से धंधा शुरू किया आज इस कंपनी का एक साल का मुनाफा सौ करोड़ रुपए के आसपास ये लूट कर ले जाती हैं आपको बेवकूफ बना के कोई क्वालिटी नहीं है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसका जब आप नीम का दातुन करें बबूल का दातुन करें और कोई कहता है कि हमसे दातुन होता नहीं तो आप उंगली से करने वाला कोई भी मंजन करिए लाल दंत मंजन बिकता है काला दंत मंजन लिखता है इस देश में सबसे अच्छा दंत मंजन घर में है नमक है मीठ उसमें थोड़ा तेल डालिए उससे बढ़िया दंत मंजन कोई यूज करें और आप जब उंगली से मंजन करेंगे तो आपको मालूम नहीं कितनी बड़ी एक्सरसाइज आप करते हैं ये जो आपकी दाहिने हाथ की पहली उंगली होती है इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट उसको कहते हैं जितनी देर आप मालिश करते हैं उतनी उंगली से उतनी देर ये पॉइंट दबता है और आपकी बड़ी आंख की मालिश होती है दांत की सफाई के साथ साथ बड़ी आंख की मालिश होती है इतना बड़ा वैज्ञानिक कर्म है उंगली से मंजन करना लेकिन हम भूलते चले जा रहे हैं क्योंकि ईडियट फॉक्स हमको उल्टी उल्टी बातें सिखा वो ये सीधी बातें कभी नहीं बता उल्टी उल्टी बातें इसलिए आप इस ईडियोसिटी में से बाहर निकले तो हिंदुस्तान का भला हो जाए 480 करोड़ बच्चों ऐसे ये तीसरा निवेदन मेरा है कि आपके घर में जो साबुन आता लक्स लाइफ बॉय लिरिल वैक्सोना ये बंद कर दीजिए कैमे कैमे लक्स क्यों लगाते हैं तो कहते हैं माधुरी दीक्षित कहते हैं हेमा मालिनी कहते हैं और मैं आपको जानकारी दूं कि माधुरी दीक्षित कभी लक्ष्य से नहीं नहा हेमामालिनी भी नहीं नहा लेकिन रोज आपको नहलाती खुद कभी नहीं नहा वो पता है किससे नहाती है ये जितनी फिल्मी हीरोइन है कोई भी साबुन नहीं लगाती ये सब नहाते हैं चने के लोट से चने के लोट में हल्दी का पाउडर डालते हैं उसमें चंदन का पाउडर और उसमें खोपरे का तेल नारियल का तेल उससे नहाते हैं क्योंकि शरीर की त्वचा बहुत कीमती है और दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना साबुन लगाएंगे त्वचा उतनी ही बेकार होती चली जाती है आप साबुन लगाइए जाड़े के दिनों में साबुन लगाने के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचे सफेद रंग की लाइन खींचेगी और कुछ लोगों का तो पूरा शरीर ही सफेद सफेद हो जाता है जानते हैं क्यों साबुन का कचरा शरीर की त्वचा से चिपक जाता है चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं इसलिए साबुन दुनिया की सबसे रद्दी चीज है तो आप पूछेंगे फिर बेस्ट क्वालिटी क्या बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी हजारों साल से इस देश में कोई इस्तेमाल होती है उससे बढ़िया क्वालिटी कहीं नहीं और मुल्तानी मिट्टी को रात में आप दूध में भिगो दीजिए कच्चे दूध में सुबह इतनी मुलायम हो जाएगी नहाने से पहले साबुन की तरह से रगड़ लीजिए गर्म पानी से नहा लीजिए एकदम शरीर फ्रेश या मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले आइए अरीठा का पाउडर ले आइए और का ही पाउडर ले आइए तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर डिब्बे में बंद करके रख लीजिए नहाने से 20 मिनट पहले एक चम्मच पाउडर गर्म पानी में डाल दीजिए और उस गर्म पानी से पूरे शरीर को रगड़ के नहा दीजिए एकदम साफ हो जाए गर्म पानी करिए उसमें नींबू निचोड़ दीजिए और उस नींबू निचोड़े हुए पानी से नहा लीजिए कभी भी शरीर में पसीने की बदबू नहीं आएगी लेकिन ये सब बातें ईडियट बॉक्स नहीं बताता वो तो उल्टी उल्टी बात बताता वो दिखाता है कि साबुन दूध से बनता दुनिया में कोई भी साबुन दूध से नहीं बनता सारे साबुन बनते हैं कास्टिक सोडा लेकिन रोज यूनिवर्सिटी दिखाते और ये साबुन बनाने वाली कंपनियां कैसे आपकी जेब काटती हैं इसका एक ही उदाहरण देखिए जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी है उसका साबुन बिकता है तीस रुपए का पचास ग्राम साठ रुपए का सौ ग्राम है छह सौ रुपए का एक किलोग्राम अब बताइए कि छह सौ रुपए का एक किलोग्राम साबुन और एक सौ चालीस रुपए का एक किलोग्राम गाय का घी क्या खरीद है जो स्मार्ट है वो छह सौ रुपए का एक किलोग्राम साबुन खरीदे क्योंकि वो कहेंगे कि हमारी स्मार्टनेस किसमें है छह सौ रुपए का एक किलोग्राम साबुन खरीदो शरीर पर रगड़ो और पानी में बहा दो ये है स्मार्टनेस और एक सौ चालीस रूपये का एक किलोग्राम गाय का घी खरीद के खाओ तो नाक चढ़ाएंगे क्या फालतू की बात करते हैं गाय का घी खाए तो ये दिमाग हो गया मानस हो गया एकदम उल्टा चल रहा है इडियोसिटी इसी को कहते हैं किसी भी साबुन में कोई क्वालिटी नहीं है सारे साबुन रद्दी क्वालिटी है इसलिए इन सारे साबुनों को खरीदना बंद करके अपने अपने घर में आप ये प्रिपरेशन कर सकते फायदा क्या होगा हिंदुस्तान की सरकार का सरकार का छोड़ो देश के अपने लोगों का आपकी जेब का मेरी जेब का करीब 500 करोड़ रुपया बचे जो बर्बाद हो जाता है हर साल सिर्फ साबुन करीब और ऐसे ही एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपने घर में ये पैप्सी कोला और कोका कोला जैसी चीजों की एंट्री बंद कर दीजिए बहुत ही खतरनाक जहर है पैप्सी कोला और कोका दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर निकाला जाता है और हम उसके साथ उसको अंदर पी कर ले जाते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ दो जहर और है फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ सोडियम ग्लूटामेट और एक है पोटेशियम सॉर्बेट ये सारे के सारे ऐसे जहर हैं जो कैंसर कर देते और ये जहर मिलाकर जो बिक रहा है उसको लहर पैप्सी कहें कि जहर पैप्सी कहें और गांव गांव गली गली में घुस गया है ये जहर पैप्सी और जिस नौजवान को देखिए वही पी रहा जिसको देखिए वही पी रहा एक स्मार्टनेस का सिंबल बन गया है लहर पर और मैं उन सबसे कह रहा हूं कि आप लहर में ही जहर पी रहे हैं और कुछ दिन के बाद आप तैयारी रखिए अपने अपने बीमार होने क्योंकि यही मुंबई के एक कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ था लहर पेप्सी पीने का मुंबई में आजकल ये सब चल गया है पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गई या तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं या लहर पेप्सी पीने के कॉम्पिटिशन होते हैं कॉलेज में कंपटीशन हुआ एक घंटे में एक बच्चे ने नौ बोतल पी लिया और दूसरे बच्चे ने आठ बोतल पिया दोनों मर गए प्रिंसिपल साहब ने एडमिट किया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने कहा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पी लिया है कि अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है इतना खतरनाक जहर है जहर पेप्सी और कोका को लेकिन उसी को आपके बच्चे पी रहे हैं आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है और साथ साथ देश की बर्बादी क्या हो रही है सत्तर पैसे की बोतल बनती है पैप्सी और कोका कोला उसको बेचते हैं आठ रुपए में नौ रुपए में दस रुपए एक एक बोतल पर कितने रुपए का फायदा और हर साल ये पैप्सी कोला 240 करोड़ रुपए कमा के ले जाता है अमरीका और कोका कोला की करीब 260 करोड़ कमा के ले जाता है 500 करोड़ रुपया तो सिर्फ उनका पानी बेचकर वो हिंदुस्तान से ले जाता है इस देश के दो लाख गांव में पीने का पानी नहीं और हम पैप्सी और कोका कोला पीते और मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कि जब भी आपके हाथ में पैप्सी और कोका कोला की बोतल आए बोतल को मुंह से लगाने के एक मिनट पहले बस एक चीज सोचिए देश के उन करोड़ों लोगों का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता और उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए कि इनको पीने का पानी नहीं मिलता मैं विदेशी कंपनी का पानी पीऊं आपका दिल अंदर से कहेगा कि तुम इससे बड़ा ज्यादा राष्ट्रीय अपराध कोई कर नहीं सकते और हो सकता है वो बोतल आपके हाथ से छूट जाए इतनी सी बात बस याद रखिए कि जब भी आपके हाथ में पैप्सी कोका की बोतल आए हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का चेहरा याद करिए जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा क्योंकि आप पैप्सी और कोका नहीं रहे क्योंकि 500 करोड़ रुपया देश के बाहर जाए ये 500 करोड़ रुपया अगर बाहर जाना रुक जाता तो हिंदुस्तान के दो लाख गांव को पीने का पानी मिल सकता ये छोटे छोटे काम हैं लेकिन करें तो बहुत बड़े साबित होंगे और अगर इन विदेशी कंपनियों का घर घर से बहिष्कार शुरू हो जाए तो आपको मालूम नहीं कि साल में सत्तर हजार करोड़ रुपया बचे और इन पैप्सी कोला कोका कोला जैसे जहर चाय कॉफी जैसे जहर से भी ज्यादा खतरनाक कुछ जहर जैसे बीड़ी तंबाकू और वो पान पराग और गुटखा ये गुटखा का जहर ऐसे ही शुरू हुआ था जैसे अंग्रेजों ने चाय कॉफी का जहर शुरू किया चाय कॉफी उन्होंने कैसे बेची मुफ्त में पहले पिलाते थे गुटखा कैसे आया इस देश में मुफ्त में बांटा जाता मुझे मेरे बचपन का याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ता था